see. अलवर के महात्माओं से रिक्वेस्ट है पीछे की तरफ बैठे अलवर के महात्मा पीछे की तरफ बैठे और अतिथियों के लिए आगे जगह छोड़ें देशभर के समस्त महात्माओं को निवेदन है कि वो पीछे स्थान ग्रहण करें अतिथियों के लिए आगे जगह छोड़ें व्यवस्था में सहयोग दें जय सच्चिदानंद माइक टेस्टिंग ये आवाज़ बंद करना ये जो दादा भगवान असीम जगह प्लेबैक जय सच्चिदानंद आप सभी का इस अलवर क्षेत्र के ऊपर इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित सभी गणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं गुजरात से आए हुए सभी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं यहाँ पर किसी धर्म किसी जाति यहाँ पर उस कोई चीज़ की बात करना नहीं चाहते हम क्योंकि दादा भगवान करके जो ज्ञानी पुरुष हो गए उन्होंने सभी धर्म को हम सभी धर्मों का स्वीकार कर सके सभी धर्मों का विनय कर सके सभी धर्मों को हम हृदय से उसको माने ऐसा दादा भगवान ने सारी बात बहुत धर्म होते हुए भी धर्म से कहीं ज़्यादा ऊपर की बात हमें किसी भी व्यक्ति से किसी भी इंसान से भेद खड़ा ना हो ऐसी वैज्ञानिक समझ बताई और वैसे ही वैज्ञानिक दृष्टि दी है क्योंकि हमारा जीवन मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है पूरी जिंदगी जी रहे हैं फिर भी हम कहीं ना कहीं दुखी है मनुष्य जन्म मिलने पर हमें क्या प्राप्त करना है हमारा ध्येय क्या है मनुष्य जन्म में ये सारी बातें दादा भगवान ने बहुत अच्छी तरह समझ और वैज्ञानिक जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेद हमारे भीतर खड़ा न हो क्योंकि दादा भगवान ने कहा जहां भेद है वहां भगवान नहीं है और जहां भेद नहीं है वहां भगवान है ही मगर हम भेद भाव से मुक्त नहीं हो पाते हैं क्या वजह है अगर सही समझ मनुष्य जन्म क्यों मिला है क्या प्राप्त करना है क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने पर अंत तक हम वो चीज प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो हमें मनुष्य जन्म में आकर हमें प्राप्त करना है और उसी बात को इस कलयुग में जिसको जैनों में पंचम आरा कहा पंचम काल कहा दूसरे में कलयुग कहा इस कलयुग में दादा भगवान ने बहुत आसान रास्ता आसान समझ बता दी संसार में रहते हुए संसार के सभी कार्य करते हुए भी कहीं पर भी हमें हम किसी को दुख न दे और कोई हमें दुख देकर जाए तो भी हम दुखी न हो ऐसा आसान रास्ता और आसान समझ बहुत बड़ी कृपा दादा भगवान ने इस कलयुग में किया खुद कहते थे आप जिस धर्म को मानते हो उसी धर्म को मानते रहो मगर सभी धर्मों के पीछे एक बहुत बड़ी सभी धर्मों के पीछे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक समझ छिपी है और वो समझ दादा भगवान के निमित्त से हम सबको प्राप्त हुआ है बिल्कुल जब यहाँ आप यहाँ से जाओगे जब यहाँ से आप जाओगे हमारा काउंटर है किताब है उस किताब हम पैसों से नहीं बांटते हैं मगर उससे कहीं गुना कहीं गुना ज़्यादा मूल्य लेकर वो किताब हम सभी को गांव-गांव में शहर शहर में कॉलेज में स्कूल में अस्पताल में हम देते रहते हैं पैसों से उनकी कीमत नहीं है मगर पैसों से कहीं ज़्यादा कीमत दादा भगवान ने रखी है जरूर उसका भी लाभ ले सकते हो हम शुरुआत करें जो दादा भगवान ने हमें त्रिमंत्र दिए तीनों मंत्र इकट्ठा बोलने से हमारे भीतर हम जिस प्रकार भेद लाए हैं ये तीनों मंत्र साथ में बोलने से भेद हट जाता है कम होता है क्योंकि तीनों मंत्र साथ में बोलना और तीनों मंत्र की समझ ऐसी है कि ये मंत्र किसी धर्म से नहीं है गुणों से है ऐसे गुण जिस पुरुष में प्रकट हुए हैं उनको मेरे नमस्कार है और सबसे पहले हम त्रिमंत्र बोल के हम बोलेंगे आपको दोहराना है उसकी शुरुआत स्वामी दीपकानंद जी हमें त्रिमंत्र बोलकर हमें शुरुआत शुरुआत करवाएंगे જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો લોય સવ સાહુણમ એસો પંચન મુક્કારો ऐसो पंचन मुक्कारो सौवपावप्पणासणो सौवपावप्पणासणो मंगलाणं च सौवेसीं मंगलाणं च सौवेसीं पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद शुक्रिया स्वामी दीपकानंद जी इसके साथ एक बहुत बड़ी कमी हम मनुष्य में जी रहे हैं मनुष्य में जन्म मिला है मगर समय समय पर हमारे भाव संजोग के अधीन हमारे भाव कभी कभार ऐसे हो जाते हैं हम ही को वो ही भाव हमको खुद को दुख देते हैं सभी धर्मों में सभी शास्त्रों में सभी इष्ट देवों में एक बात बहुत बड़ा रखा है एक बात बहुत बड़ी है आपका सब कुछ बिगड़ जाए सब कुछ खत्म हो जाए फिर भी आपके भाव बिगड़ने नहीं देना चाहे आप किसी भी धर्म करते हो कोई भी क्रिया करते हो तब त्याग साधना मगर भगवान के वहाँ भावों की वैल्यू है जिसने भाव से छोटी चीज भी अर्पण की हो भगवान स्वीकार करते हैं और एक ने बहुत कीमती चीज जो इस दुनिया में सबसे कीमती माना जाता है वो कीमती चीज भगवान के चरणों में अर्पण किया मगर भाव नहीं थे तो भगवान कहते हम कोई चीज कोई वस्तु के भिखारी नहीं हैं क्योंकि भगवान खुद इतने सुख लेकर बैठे हैं उनको ये कोई चीज कोई वस्तु सुखी नहीं बना सकते और उसके लिए वो उनका भिखारीपन भी नहीं है मगर देने वाले का भाव कैसा है उनकी नीयत क्या है उस प्रकार भगवान स्वीकार करते हैं ज़्यादातर हमारे रोजिंदे हमारे रोज ब रोज दिन और रोज ब रोज के जीवन में हम कच्चे पड़ जाते हैं भाव से और भाव से कच्चे पड़ने पर वाणी से कच्चे पड़ जाते हैं क्योंकि जहाँ पर वाणी का कितना यूज़ करना है कितना उपयोग करना है वो हम भूल जाते हैं और बहुत अच्छा कहा भगवान ने कि अगर मैं चाहूं तो मैं एक जगह बैठकर सभी को दर्शन दे सकता हूं चाहे वो आदमी एक लाख किलोमीटर क्यों ना दूर बैठा हो मैं अपनी जगह बैठकर उनको दर्शन दे सकता हूं क्यों भाई ऐसा कैसे है तो कि हम कोई चीज़ के भिखारी नहीं है केवल उनके भाव देखकर हम उनके पास पहुंच जाते हैं हम छोटा सा एक भावों की प्रार्थना है विश्व शांति विश्व में अहिंसक समझ बढ़ती जाए और हिंसक समझ कम होती जाए ऐसी हम सब साथ में प्रार्थना करें एक छोटा सा भजन छोटा सा छोटा भक्ति का एक भक्ति की प्रार्थना भक्ति करते करते हम ये भाव रख रहे हैं कि पूरे विश्व में सुख शांति प्राप्त हो केवल सुख और शांति प्राप्त हो पूरे विश्व के जीवों को इतना ही नहीं कहाँ पर है वो सुख शांति कोई चीज में है कोई वस्तु में है कहाँ पर है वो सुख और शांति और जहाँ पर है उसकी भी पहचान कराते हैं तो मैं स्वामी बिहारी आनंद जी से विनती करता हूँ कि हम सभी को आपके सच्चे हृदय से ये भजन आप ऐसा गाओ कि हमारा हृदय ये विश्व शांति फैलाने में हम एक हो जाए स्वामी बिहारी आनंद जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हाँ जी सभी को ये दोहराना है ये गाएंगे हमको भी साथ में झेलना है ये खास लक्ष्य में रखिए ये विश्व में सुख और शांति हो ये भी स्वामी में सुख और शांति हो ऐसी करू प्रा प्रतिष्ठित सभी गणजनों का हम हृदय से स्वागत करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक दादा भगवान करके ज्ञानी पुरुष की एक सही समझ और सही दृष्टि की बात करने का हमें मौका मिला है कहते हैं मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता मनुष्य जन्म हमें बहुत कम कभी कभार मिलता है और मनुष्य जन्म में आकर हमें क्या करना है कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए भगवान महावीर स्वामी ने मनुष्य जन्म में परमात्मा होकर कहीं लोगों को कहीं लाखों लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त करवाया उसी प्रकार मनुष्य जन्म में राम भगवान हुए और हनुमान को दृष्टि प्राप्त करवाई ये कर्म कर्मफल क्या है और कर्म और कर्म फल हमें समझ में नहीं आता है तो भगवान कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं और कृष्ण भगवान का क्या विजन था क्या क्या उनकी क्या दृष्टि थी इस पर थोड़ी सी बात हमारे साथ गुजरात से जय सच्चिदानंद संघ के सभी वडिल सभी ट्रस्टी उनकी भी बहुत भाव है दादा का ज्ञान किसी भी तरह लोगों तक पहुँचे उनमें एक हमारे गुजरात से हमारे प्रतिष्ठित उत्तम भाई मेहता एक सबसे बड़ा प्रश्न है कर्म फल क्या है किसको कहते हैं और कृष्ण भगवान ने ऐसा कौन सी समझ और कौन सी दृष्टि प्राप्त करवाई ताकि हम कर्म फल से घबराए नहीं तो मैं सभी यहाँ पे प्रतिष्ठित पधारे हैं पूज्य दादाजी ज्ञानी पुरुष परम पूज्य ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की कृपा और दादा भगवान की आज्ञा वो भी पधारेंगे उसके पहले ये पहला प्रश्न है कर्म फल और भगवान कृष्ण भगवान ये कर्म फल में कौन सी दृष्टि प्राप्त करवाई उसके लिए मैं उत्तम भाई मेहता से विनंती करता हूँ कि आप जरूर इनके ऊपर प्रकाश करें हमारा જય સચ્ચિદાનંદ અલવરવાસીઓ ભાઈઓ બહેનો અને આમંત્રિત મહેમાનો जो विषय है वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड रिलीजन वैज्ञानिक ऐसे क्या प्रिंसिपल हैं कोई भी धर्म के लिए उसके बारे में ये विषय रखा गया है जनरली किसी को ये कहा जाए धर्म और साइंस इनको हम प्रवर्तमान हमारा जो समझ है उसके हिसाब से दोनों विरोधी शब्द हैं साइंस ऐसा माना जाता है कि ये स्कूल में पढ़ाई जाती है कॉलेज में पढ़ाई जाती है इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है मेडिकल में पढ़ाई जाती है लेकिन धर्म इन सबसे अलग है धर्म किसी भी चीज़ का स्वभाव है धर्म जब उसका स्वभाव है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म और मनुष्य जीवन इसको हम सेंटर में रख के बात करेंगे मनुष्य जीवन मनुष्य मानव धर्म मानवता अगर ये सेंटर में है क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी जीव की पहचान उसके गुणधर्म से होती है मेरा गुणधर्म है मुझे कोई भी कहेगा इतनी सी जीव राशि में कि ये मानव है मनुष्य है तो मनुष्य के गुणधर्म क्या है और उन गुण धर्म में परिवर्तित हो वह जो कार्य है उसके जो कारण है वो मैं उन कारण का उपयोग करूं तो वो बीज में बोऊंगा तो पेड़ मुझे मिलेगा और इस जो रिलेशनशिप है कारण और कार्य की इसी को साइंस कहा जाता है अब सवाल यह आता है प्रवर्तमान अभी जो साइंस है जो विज्ञान है उसमें और धर्म में जिस तरह की आस्था और मान्यता दी जाती है और मान्यता कही जाती है छोटे बच्चों को कहा जाता है कि मंदिर में तुझे जाना है किसी चीटी को अपराध नहीं करना है सत्य बोलना है चोरी नहीं करनी है क्यों ऑब्जेक्टिव मनुष्य जीवन का क्या है मनुष्य जीवन क्या चाहता है मानव क्या चाहता है निमेश भाई ने कहा कि सर्वोत्कृष्ट जन्म मानव जीवन है तो इसका मतलब है कि सारे ब्रह्मांड का या सारे विश्व का अगर सुख किसी जीव राशि के पास में है तो मनुष्य के पास में है पर हमारा अनुभव क्या है एयर कंडीशनड है पसीना छूट जाता है एक इनकम टैक्स का लेटर आता है मैं परेशान हो जाता हूँ अंदर से हमेशा डर रहता है ये जो मिडल ईस्ट में हो रहा है उसी कारण से मेरे व्यापार पे क्या असर होगी यह ऑयल की प्राइस कहाँ लेके जाएगी इकोनॉमी का क्या होगा मेरी प्रोफेशनल सर्विस का क्या होगा क्या प्राप्त करना है सुख और सुख मुझे प्राप्त करना है और हमेशा मैं डर में रहता हूँ तो सुख और डर ये दोनों बिल्कुल विरोधाभासी है मेरे ख्याल से भाइयों बहनों आप इसे स्वीकार करेंगे तो सवाल ये है कि जो कार्य है जो हमें सनातन हमें संस्कार मिले हैं मंदिर जाना बड़ों का विनय करना ये जितने भी संस्कार मिले हैं यह कार्य है ये एक परिणाम है क्या गलत है कि ना सनातनता इसकी सिद्ध हुई भी है और इन्हीं कारणों को सेव के इन कारणों इन कार्यों को जिन्होंने बताया है उन्हीं लोगों की हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं लेकिन उसके पीछे कारण क्या है और उस कारण और कार्य को हमने जब उसको संधान नहीं कर पाते हैं तभी धर्म शुष्क हो जाता है यहाँ पर किसी धर्म की बात नहीं है कोई भी धर्म मैं अपनाता हूँ मैं संप्रदाय अपनाता हूँ मैं चाहे क्रिश्चियन हूँ मुस्लिम हूँ हिंदू हूँ वैष्णव हूँ उसके चाहे जिस भाग में मैं हूँ मेरा अबाधित अधिकार जो मेरा स्वयं का है मेरा अपना धर्म है क्योंकि उसमें रूपांतर होना शक्कर का धर्म मीठा से है नमक का धर्म कड़वा से है तो मेरा भी अपना मानव या मनुष्य के रूप में मेरा अपना धर्म क्या है और मुझे क्या अनुभव में आता है इन दोनों विरोधों को हम वैज्ञानिक ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो पहले मैं हम इसे विज्ञान के एंगल से देखेंगे विज्ञान से हमारी जो नेचर के साथ में कनेक्टिविटी है उसको देखेंगे फिर हम कर्म कर्म फल पर आएंगे और उसके बाद हम धर्म और धर्म के उसके रूपांतर को देखेंगे ताकि धर्म से हम विज्ञान समझ सकें और विज्ञान से समझ धर्म को समझ सकें यही वैज्ञानिक संयोग यही वैज्ञानिक रिलेशनशिप हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा परंपरा थी आर्यन संस्कृति है और वो हमारे हृदय में बसी हुई है सिर्फ ज़रूरत है उसे खोलने की और ऐसे दीपक प्रगटाने वाले ऐसे परम पूर्य परम पूज्य ऐसे पुरुष जब अवतरित होते हैं अवतरित एक बट नेचुरल नेचुरल क्रिया है उसमें अवतरित होते हैं तो उसे पूर्ण रूप से फिर से प्रस्तावित करते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नई चीज़ देते हैं जो है जो आर्य संस्कार की जो धारा है सनातन धारा है उसको सिर्फ खुला करते हैं अब हम विज्ञान को समझने की कोशिश करें चलिए हम भौतिक विज्ञान की बात करते हैं हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं हम गणित की बात करते हैं हम ब्रह्मांड में तारों की गति की बात करते हैं रॉकेट को भी हमने चंद्रमा तक पहुंचा दिया इसका मतलब है कि विज्ञान एप्लीकेबल है उसकी कैलकुलेशन एप्लीकेबल है तो अगर वो एप्लीकेबल है विज्ञान तो उसके द्वारा हमने सबसे पहला ये हाइपोथेसिस की ये हमने परिकल्पना की कि हम सुविधाओं को खड़ा करें उसी को डेवलपमेंट कहा जाएगा हमारा जीडीपी बढ़े हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़े देश में बहुत सारे रोड बने उद्योग बने लोगों को रोजगारी मिले पर सवाल यह है कि यह सब डेवलपमेंट हिंदुस्तान चलो हम पिछड़े देश में कहूँगा लेकिन जहाँ पर यह डेवलप्ड है क्या लोग सुखी हैं एक एग्जाम्पल देता हूँ किसी की यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें बात समझ में आए स्वीडन जैसा देश नोबल प्राइज़ उस स्वीडन के निवासी ने निकाला हुआ है मल्टीनेशनल्स करीब करीब 25 टका कंपनी उस स्वीडन की हैं पर कैपिटल इनकम उसकी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है आपको भाई और बहनों ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा सुसाइड वहाँ पर होते हैं क्यों अब सवाल ये है मैं एक इंडिविजुअल हूँ मैं एक इकाई हूँ मैं एक व्यक्ति हूँ अब ये व्यक्ति का पर्यावरण के साथ में इकोनॉमी के साथ में कोई संबंध तो होगा ना क्योंकि जब मैं इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ तो मैंने समझ लिया कि मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो मैं खुद हूँ मैं खुद जिस रूप में मानता हूँ मेरी अस्थि है मैं अस्थि अस्थि मतलब अस्तित्व मेरा अस्तित्व है कोई भी जीव का अस्तित्व है तो उस अस्तित्व से ही मैं उस विराट और विराट से अस्तित्व तक की दूरी साइंटिफिकली मैं मापना चाहता हूँ मान लो मैं श्वास लेता हूँ तो मेरी श्वास ली हुई किसकी छोड़ी हुई है मुझे मालूम नहीं कौन से पेड़ ने छोड़ के मुझे श्वास दिया है मुझे मालूम नहीं लेकिन वातावरण से मुझे श्वास मिलती है और वातावरण में उस श्वास उस एयर का प्रमाण बराबर रहता है मुझे कोई शरीर से आने नहीं पहुँचाता है लेकिन मेरे रिलेशन में या मेरी वाइफ की तबीयत बिगड़ गई ऐसा मुझे समाचार आता है तो मुझे दुख होता है मैं कितना उस रिलेशन से रिलेटेड हूँ मैं उस रिलेशन से बंधा हुआ हूँ ऐसी रिलेशन मेरी या किसी भी जीव की कितने जगह से है अगर कार्बन एमिशन बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग है पूरा संसार इकट्ठा होता है कि ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशन कैसे कम किया जाए तो अगर कार्बन एमिशन कम किया जाए तो अमेरिका को क्यों तकलीफ क्यों ज़रूरत पड़ती है हिंदुस्तान में या चाइना में कार्बन एमिशन कम हो और क्यों नरेंद्र भाई मोदी को वहाँ जाके ये कहना पड़ता है कि डेवलप कंट्री को कार्बन एमिशन उनका ज़्यादा है उसमें प्रमाण हमें बराबर करना है क्यों क्योंकि ग्लोबली इट इफ़ेक्ट्स एवरीबडी हमें संसार में बनी हुई कोई भी घटना मुझे इफ़ेक्ट करती है तो ये इफ़ेक्ट है अगर इफ़ेक्ट है तो क्या मैं एक इंडिविजुअल हूँ मैं लिखता हूँ आई क्या वो आई आई है सिंगुलर है क्या वो एक वचनी है कि बहुवचनी है पूरी दुनिया से मैं कनेक्टेड हूँ क्या पूरे जीव पूरी जीव सृष्टि क्या उससे कनेक्टेड नहीं है अगर मछली है पानी के अंदर तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मछली मर जाती है हम सब जानते हैं तो हर तरह का नेचुरल बैलेंस अगर बिगड़ता है उसकी असर हर जीव को होती है तो सवाल ये है कि वो असर को मुझे दूर करना है सभी चाहते हैं विश्व में पूरा पूरा विश्व चाहता है ग्लोबली ये एक बड़ी समस्या है आज की तारीख में इसका सॉल्यूशन देने वाले को काफ़ी सारी उसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है कि इसका सॉल्यूशन देने वाला इस इस पूरी मानव राशि पर सबसे बड़ा उपकार करेगा पर ये सारे कितने भी उपकरण कितने भी सिस्टम हम लाए क्या उसमें से उसमें परिणाम आया है मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो गलत हैं मैं ये नहीं कर रहा हूँ जिस साइंस को मैंने साइंस कहा है साइंस को अपन समझने की कोशिश करें साइंस मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल जो कहीं पर किसी भी समय हर समय हर जगह पर एप्लीकेबल हो उसी साइंस कहा जाता है उसमें एक्सेप्शन नहीं होता है लेकिन आप समझिए जितने भी वैज्ञानिकों ने जितने भी प्रिंसिपल दिए हैं बेसिकली वो प्रिंसिपल नहीं है थ्योरी है चाहे वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है थ्योरी ऑफ मोशन है क्यों थ्योरी का नाम दिया गया है जब मैं उस थ्योरी की इक्वेशन बनाता हूँ मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि ये दो परमाणु इकट्ठे हुए हैं और इनकी गति इसी डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी मैं संभावना दे सकता हूँ मैं एक हाइपोथेसिस कर सकता हूँ और उसे मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ क्यों क्योंकि थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी को हर वैज्ञानिक मानता है संभावना को हर वैज्ञानिक मानता है थ्योरी प्रोबेबिलिटी को हर मैथमेटिशियन मानता है मेरे ख्याल से आप सब एग्री होंगे ये शब्द मैं इसलिए उपयोग उपयोग कर रहा हूँ कि जिस साइंस को हमने एक ऐसा समझ के हमने स्वीकार किया हुआ है कि इसका कोई भी विकल्प नहीं है उस साइंस इट्सेल्फ जितनी भी साइंस प्रवर्तमान अभी है वो सारी की सारी हाइपोथेसिस पर आधारित है मटेरियल साइंस पर आधारित है उस मटेरियल का जो संयोजन है वो संयोजन किस प्रकार होता है और किस प्रकार नहीं होता है कब कैसे बिगड़ता है उसके बारे में जानकारी नहीं है ये बात कहना मेरे लिए स्पष्ट इसलिए है कि आज वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं चलिए अब अपन आइंस्टाइन की बात करें इस युग का युग पुरुष वैज्ञानिक लेकिन आइंस्टाइन ने क्या कहा अंत में वो कहते हैं कि religion without science is lame religion science के बिना लंगड़ा है and religion without science is blind क्यों ऐसा तो फिर हम ऐसा क्यों मानते हैं कि रिलीजन अलग चीज़ है और धर्म व्यवस्था अलग चीज़ है क्योंकि वह जो मूल बात उनको कनेक्ट करने की जो युगों से थी हमारे साथ में सनातन धर्म के अंदर वो प्रिंसिपल था दैट वाज मिसिंग मिसिंग मतलब उसकी समझ और उसी समझ की हम आज प्रश्नोत्तरी द्वारा या आ, उसे आ, हम इसे विवेचन के द्वारा उसको हम खुला करने की कोशिश करेंगे अब सवाल यह है कि आई सारे ब्रह्म सारे विश्व से कनेक्टेड है तो इसका मतलब सिंगुलर भी है प्लूरल भी है एक वचनी भी है और बहुवचनी भी है इसका मतलब ये हुआ कि मैं सारी जगत से कनेक्टेड हूँ अब हम आए कि जो मैं कनेक्टेड हूँ वो तो ठीक है फिजिकली ऑक्सीजन छोड़ता है मैं लेता हूँ अब जब कनेक्शन को अगर हम देखें उसको और डिटेल में देखें तो कौन सा कनेक्शन है मानो किसी भी जीव मतलब मन वचन काया वो उसका कन्फिग्रेशन है वो मन वचन काया इसमें मन जो है बाकी सब जीव राशि में सुषुप्त है जबकि मनुष्य के अंदर खुला हुआ है और मानव जब स्पंदन उसके जो स्पंदन है वह एक स्पंदन नेगेटिव या पॉजिटिव इस प्रकार से एक मानव दूसरे मानव समाज उसके जो स्पंदन है वही नेचर में जाते हैं और वही उसे हम कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं या पर्यावरण जिसके द्वारा निर्माण उसी से होता है और उसके ये मैनिफेस्टेशन है कार्बन एमिशन या भूकंप आना ये सब उसके मैनिफेस्टेशन है अब इसको अपन और समझने की कोशिश करें मेरे ख्याल से आप सब प्रबुद्ध वर्ग है और मैंने देखा है कि अलवर उस हिसाब से एक एवरेज जानकारी के हिसाब से अलवर एक बहुत ही डेवलप्ड जगह है आप समझ सकते होंगे आज की तारीख में इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया है इवन यहाँ तक कहा है कि दो परमाणु अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप और दो होल बनाए हैं पहले वो ट्रैवल करते हैं सीधी लाइन में करते हैं लेकिन अगर दो होल बनाए तो वो अपने आप से अपनी ट्रैवल गति उस तरह से कर लेते हैं ताकि उस उस होल में से निकल सके तो क्या परमाणु की आँख है इस तरह से हमने उस थ्योरी को विघटन करके उस थ्योरी में डिटेल में जाने की कोशिश की उसको विघटित किया कि अगर परमाणु में आँख है तो परमाणु का छोटा से छोटा कण चाहे वो क्वार्ट्स के रूप में है स्ट्रिंग के रूप में है क्वांटम फिजिक्स के रूप में है और उसी में से हिग्स बोजोन जो गॉड पार्टिकल के रूप में है हमने उसका नाम दिया सवाल यह है क्या गॉड पार्टिकल में हो सकता है क्या गॉड के अंदर पार्टिकल होने की कोई भी तरह के गुण उसमें हैं क्योंकि गॉड और पार्टिकल दोनों के गुण धर्म से ही उसकी पहचान होती है गॉड पार्टिकल में गॉड के गुण नहीं हो सकते तो सवाल यह है गॉड कहाँ है is that he is a creator क्या वो क्रिएटर है क्या वो डिस्ट्रॉयर है तो सवाल ये है हमने पढ़ा है जब हम ये कहते हैं कि आई एक वचनीय है आई बहुवचनीय है और उसी में भारतीय संस्कृति में हमने सब जानते हैं अहम ब्रह्माष्टमी जो शब्द आया है अहम ब्रह्माष्टमी अथवा मैं ब्रह्मांड पूरा मेरे से प्रदर्शित होता है ब्रह्मांड से मैं प्रदर्शित होता हूँ उसी में से आया हुआ और स्पेशली वो मानव के लिए लागू पड़ता है क्यों मानव के लिए लागू पड़ता है कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर अनलिमिटेड माइंड है और उसी माइंड के कारण से वह भगवान की प्रतिकृति कहलाता है इवन फिजिकली भी अब सवाल यह है कि भगवान कहाँ है भगवान किस प्रकार है और ये हिंदुस्तान क्या है ये आर्य क्या है ये भारत क्या है हम भारत और भारतीय की बात करते हैं तो क्या भारत सबसे अलग है क्या हमें दूसरे देशों से भेद है तो नहीं इवोल्यूशन डार्विन ने इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया वैज्ञानिक ने प्राणी में से मनुष्य बना तो मनुष्य का भी इवोल्यूशन जो होता है उसका मतलब है उसकी बिलीफ का इवोल्यूशन मैं अस्थि मैं मानता हूँ कि मैं हूँ पर मैं किस रूप में मानता हूँ मैं इंजीनियर हूँ मैं डॉक्टर हूँ मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ मैं इसका पतिदेव हूँ मैं इसकी पत्नी हूँ अगर मेरी जो सोच है उस सोच का परिणाम और परिमाण दोनों ही हैं उन दोनों के बीच में मैं खुद क्या हूँ ये हर जीव का अलग अलग धर्म है इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि हर जीव का अपनी गीता है और अपनी रामायण है लेकिन फिर भी गीता और रामायण पढ़ाई जाती है एक आदर्श पुस्तक के रूप में एक आदर्श बिहेवियर के रूप में अपन हम उस पर अब आए उस पर आएंगे तो सबसे पहले ये जो रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट की अथवा हम उसे कहें विज्ञान जो शब्द है दो शब्दों से बना है वी और ज्ञान वी का मतलब है विशाल विशाल ज्ञान मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मेरे घर में पेपर न्यूज़पेपर देने वाला न्यूज़पेपर देता है न्यूज़पेपर देता है तीस तारीख होती है और न्यूज़पेपर वाला बिल लेकर आता है कि भाई भाई साहब दो रुपये का एक न्यूज़पेपर तीस दिन का साठ रुपये की उसकी वैल्यू है गणित की भाषा में या अर्थतंत्र की भाषा में मैं उसे पेमेंट करता हूँ तो मेरा लॉस हुआ साठ रुपये मैंने दिए मतलब मेरे से कम हुआ और उसका बढ़ा लेकिन मैं वो हंसते हंसते करता हूँ आराम से करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि उसने पेपर दिया है मेरे सामने उसने दिया है मैंने पेपर पढ़ा है और मैं उसका साठ रुपये दे रहा हूँ तो क्या दैनंदिनी जीवन में जो मुझे कुछ भी करता है दखल करता है तो क्या उसने पेपर नहीं डाला होगा ये क्या समझने की बात नहीं समझ सकते हम क्यों वो जो पत्थर पड़ा था रोड पर उससे सब लोग गुजर गए कोई गिरा नहीं मैं ठोकर खा के गिरा उस समय मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ पर इस प्रकार की प्रकृति जिससे मैं ठोकर खा के गिरता हूँ मैं दोष कहता किसको देता हूँ उस व्यक्ति को देता हूँ पत्थर होता है मैं दोष नहीं देता हूँ और व्यक्ति होता है मैं उसको दोष देता हूँ ये जो विरोधाभास है यही अधर्म है अब मानव जीवन और जहाँ तक उत्क्रांति की बात हमने कही है मनुष्य डेवलप होते होते मनुष्य के जीव में उसका जन्म होता है वो डेवलप होते हुए वो अफ्रीका यूरोप वहाँ से होते होते उसका भारत भूमि में जन्म होता है अब भारत भूमि ये आर्यन भूमि है यहाँ का व्यक्ति डेवलप्ड है विश्व गुरु जो कहा गया है यह कोई भेद करने के लिए नहीं कहा है लेकिन ये वास्तव में अगर उसकी वैज्ञानिक समझ हमें होगी तो हम ये कह पाएंगे विश्व गुरु किसी का गुरु नहीं होता है बल्कि वो सबका शिष्य होता है उसे विश्व गुरु कहा जाता है और सबका शिष्य किस रूप में है कि वह सभी तरह के व्यू पॉइंट को वो स्वीकार करता है और वो सभी तरह के व्यू पॉइंट को स्वीकार करके अपनी उत्क्रांति को कायम रखता है और भारतीय का एक एक स्पंदन राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ अथवा किसी भी तरह का स्पंदन इस वातावरण में जाता है और वही इकोलॉजी बनकर हमारे पास में वापस आता है उसमें सबसे सब भूमिका मानव की है लेकिन सबसे बड़ी भूमिका भारतीय की है और इसलिए इसे कहा गया है कि मानव जीवन सबसे उत्कृष्ट जीवन है लेकिन उसके साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी है किस लिए कि मेरा धर्म कायम रहे और मैं अगर धर्म मेरा कायम रहेगा तो ही मेरे को उसका स्वाद आएगा जो कि मानव धर्म का मानव जीवन का अबाधित अधिकार है सुख कैसा सुख जो आने के बाद जाए नहीं तो उसे प्राप्त तभी कर सकेंगे जब हम ये वैज्ञानिक संयोजन और उसके कारण और कार्य को हम देख सकें चलिए अब हम बात करें करने की बात आती है मैं करता हूँ या किया जाता है किसी भी बहनों से पूछें तो सब आप चाय बनाइए तो कहेंगे हाँ मैं चाय बना सकती हूँ हम कहेंगे बहन जी चाय बना के लाइए तो आप खड़े होंगे रसोई की तरफ जा रहे हैं क्यों भाई आप चाय बना सकते हैं रसोई में जाने की क्या ज़रूरत है तो बोलते नहीं रसोई में इसलिए जा रही हूँ कि मुझे तपेली चाहिए चाय चाहिए शक्कर चाहिए तप दूध चाहिए पानी चाहिए गैस चाहिए और इसके अलावा सूक्ष्म और सूढ़ कितने सारे संयोग चाहिए तब चाय बनती है लेकिन मैं मानता क्या हूँ मैं करता हूँ अब मैं करता हूँ और उसी सारे संयोगों को मैं नहीं मानता हूँ और संयोग के द्वारा जो होता है और मैं भी एक संयोग हूँ ऐसा अगर मैं मानूँ तो बहुत सारी विपत्तियाँ हमारी कम हो जाएंगी हमारी बहुत सारी आशंकाएं कम हो जाएगी और हम उस रियलिटी रियलिटी को हम समझ सकेंगे परम पूज्य दादा भगवान ने आज इस बारे में बड़ा सुंदर कहा उन्होंने कहा कि तीन थ्योरी काम करती है हमने बात की आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षवाद का सिद्धांत लेकिन सापेक्षवाद कि सापेक्षवाद अगर हम कहते हैं तो सापेक्षवाद ने आइंस्टाइन ने वो जो आइडियल फ्रेम है जो न्यूट्रल फ्रेम है जो एक बेस फ्रेम है उसे कल्पना की है लेकिन वह कल्पना वो अगर साकार हम करें हमसे वो आइडियल फ्रेम जो है वो बेस फ्रेम मैं खुद हूँ और मैं खुद से उसे कनेक्टेड हूँ दादाजी पधारे हैं हम उनका स्वागत करेंगे खड़े होके हम्म? दादा भगवान इसी बैठिए सब शुक्रिया सभी का शुक्रिया सभी महानुभवों का शुक्रिया इसी सब्जेक्ट के ऊपर एक बहुत अच्छी चार लाइन मैं बताना चाहूँगा मानो मानव के भव में साथ मिले दूसरी सब गतियों में दूसरी सब गतियों में कर्मो फल रस पीले कर्मो फल रस पीले तके शिव बनो ईश्वर जागृत कर दो ईश्वर जागृत कर दो मानव से देव बनो मानव से बनो खुद को ही खुदा कर दो खुद को ही खुदा कर दो स्तुति में शिव भगवान और जीव की बात की है मानव में से शिव तो शिव के भी अंतकरण वही है मन बुद्धि चित अहंकार मेरे भी वही मन बुद्धि चित अहंकार हैं अंतकरण और बाह्यकरण उनका भी शिव जो हैं वो भी मानव में कल्याण स्वरूप का उत्कृष्ट रूप है इन सभी की जो भजना है ये सब सजीवन मानव देह के रूप में है तो अब जीव में थे शिव और शिव की क्या उसमें फ़र्क है तो दृष्टि का फ़र्क है मन का फ़र्क है तो किस आधार पर है उनकी जो दृष्टि है वह एक कौन सी दृष्टि है वह दृष्टि उनकी जिसमें रिलेटिव और रियल दोनों का बैलेंस है और जहाँ पर रियलिटी में वो दोनों फंक्शनल है ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि हमें तीन थ्योरी को समझना पड़ेगा theory of relativity theory of reality और थ्योरी ऑफ एब्सोलिटिज्म तीनों एक साथ फंक्शनल हैं और थ्योरी ऑफ जो रियलिटी है वो जो कार्य रूप में ये मानव देह है और कारण रूप में उसके साथ में जो कनेक्शन है वो विज्ञान का है और ये वैज्ञानिक जो अभिगम है कारण और कार्य का बीज और पेड़ और पेड़ और बीज इसकी जो रिलेशनशिप है वह हमें जितना हमें जानने में आएगी जितना वो विज्ञान के रूप में हमारे समझ में फिट होगी उतना ही मेरा इवोल्यूशन होता है होता और मैं वो सारे समाधान ले सकूँगा जिन समाधान के लिए ये जीवन मिला है सुख दुख क्या कल्पना है फिक्शन है क्या सच्चाई है आप देखिए अगर सचमुच पूछें तो देह के सु, सु, दुख को दुख कहा जाएगा पर हम हम में से किसी को भी देह का दुख नहीं है सब तरह के देह की सुविधा है एसी है पंखा है घर में सब तरह की सुख सुविधा है लेकिन दुख किस बात का है क्योंकि देह के दुख के अलावा मन हमारा समाधान नहीं पा, पाता है क्योंकि मन बंधा हुआ है अपने अभिप्राय और अपने जो उसकी जो समझ है जो उसकी जो उल्टी समझ है उससे बंधा हुआ है और वो मन जो बंधा हुआ है उसके आधार पर उसका अंतकरण काम करता है और अंतकरण के आधार पर उसका बाह्यकरण रूपक में आता है और बाह्यकरण जो रूपक में आता है जो मेरा ये मन वचन काया है वो उस तरह से फंक्शनल होता है और मैं जहाँ सुख है जहाँ मेरी स्थिति है जहाँ मेरा धर्म है उसकी जगह मैं किसी और धर्म को मानता हूँ और ये मृग मरीचिका की मेरी जो दौड़ है वो दौड़ होती ही रहती है सिर्फ जबकि आर्यन संस्कार मिले हैं भारतीयता मुझे मिली है भारतीय जीवन मिले मुझे मिला है जिसमें सबसे ज़्यादा इस समझ का डेवलपमेंट हुआ है उसी डेवलपमेंट की उस स्टेज का जो डेवलप्ड और दृष्टांत स्वरूप है वो पुरुष हमारे बीच में है कनु दादाजी अब हम हमने दृष्टांत के रूप में रामायण की बात की महाभारत की बात की हमारी क्या समझ है कृष्ण भगवान ने कृष्ण भगवान ने जरासंध को मारा कृष्ण भगवान ने महारत महाभारत को खड़ा किया और महाभारत में इन पांचों पांडव को उसमें प्रवृत्त किया उस लड़ाई के लिए जिसका नाम धर्म युद्ध दिया जाता है आज की यंग जनरेशन कहेगी कि भाई अगर महाभारत अगर क्रिया है वो कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो करने का फल आएगा या नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक समझा है कि कारण से कार्य है तो कार्य अगर इस तरह का बना है कि कोई मारा है किसी ने तो उसका कारण भी होना चाहिए लेकिन ये समझ की जगह पर सवाल यह है कि जरासंध मरा गया या मारा उन्होंने क्या पांच पांडवों ने उन कौरवों को मारा ये वो मारे गए कौरव अर्जुन रथ बीच में लाकर कहते हैं कि मैं मेरे रिलेशन मेरे इन रिलेटिव को मार नहीं सकता हूँ तब कृष्ण भगवान उन्हें गीता का संदेश देते हैं और गीता का संदेश देने के बाद में उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है उसी बीच उनका समर्पण होता है और जब समर्पण होता है तो उनको दिव्य चक्षु उनको दिखता है कि ये तो मरे हुए लोग हैं और मैं मार रहा हूँ अब मरे हुए लोग का मतलब क्या श्वास उनमें है लेकिन ये प्रारब्ध का भाग है ये प्रारब्ध लेकर आए हैं और ये मेरा फर्ज है ये दृष्टि के साथ में वो लड़ाई करते हैं लड़ाई जीतते हैं इतने लोगों का हनन होता है और उसी उसी जन्म में पांचों पांडवों का मोक्ष होता है गीता में ये कहा गया तू कर्म कर कर्म का अधिकार तेरे पास नहीं है कर्म के फल का अधिकार नहीं है सवाल ये है मैं इसे गाता हूँ मैं इसे समझता हूँ क्या फल की अपेक्षा बिना कोई भी कार्य मैं करूँगा यहाँ पर बहुत समझने जैसी बात है मानव जीवन के अंदर दो चीज़ है चाहे उसे हम प्रारब्ध पुरुषार्थ कहें या उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डिसाइडेड एंड डिसीजन कर्म किसे कहते हैं कर्म जो है जो क्रिया बनती है उसमें मेरा डिसीजन क्या है कृष्ण भगवान या राम उस पूरे युद्ध में राम जो पूरे युद्ध में जो राम जो लड़े और राम से मारे गए लेकिन अंदर का राम बिल्कुल निष्काम थे वो निष्काम कर्म वो उसके आधार पर उनको मोक्ष हुआ वो निष्काम कर्म क्या मैं कौन हूँ और ये मेरा इसके साथ में क्या रिलेशन है वो रियलिटी जिनके अंदर फंक्शनल है एट ए टाइम ऐसे जो पुरुष हैं वो पुरुष सारे कर्मों को क्षय ये कर्म फल जो है उसका क्षय करके और मोक्ष में जाने के अधिकारी बनते हैं या वो मुक्त होते हैं यहाँ पर मोक्ष कोई कल्पना की बात नहीं है मोक्ष मतलब मुक्त भाव और वो मानव जीवन में ही हमें महसूस होता है कि मुक्त भाव किसे कहा जाता है बंधन हमें मालूम है तो मुक्त भाव क्या है सारी चारी बाहर की सारी क्रियाएं होते हुए भी हम अपने आप को मुक्त मान सकते हैं मुक्त समझ सकते हैं मुक्त अनुभव कर सकते हैं यही उसकी मिस्ट्रीज़ है रामायण और महाभारत की मिस्ट्रीज़ यहाँ पर कोई गुप्तता के रूप में नहीं कह रहे हैं लेकिन सिर्फ उसकी प्रकाशित करने की कोशिश की गई है कि भाई राम भगवान का संदेश क्या है एक आदर्श जीवन उन्होंने जिया लेकिन भाइयों और बहनों हमारी रामायण और महाभारत अलग है हमारे पात्र भी अलग हैं हमारे कौरव पांडव भी अलग है लेकिन वह जो एक एक रामायण एक ऐसे पात्र की पूरी कहानी कहती है जिसका मैसेज क्या है वो मैसेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैसेज को अगर हम कहें बिटवीन द लाइन्स है या उसका मॉरल है उस रूप में हम अगर उसको समझेंगे तो यही हमारे लिए पथ दर्शक हो जाएगा और हमें आगे लेके जाएगा एक एक मिनट इसी बात को हम आज तक हम ये मानते थे मानते भी है कि भगवान ही सब कुछ कर रहा है भगवान ही चला रहा है भगवान ही सब कुछ कर रहा है करते करते करते कलयुग में भगवान को ऐसे दिखाया कि भगवान सभी को मारते भी है अगर एक सीधी सादी बात है कोई एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है तो भगवान की बात नहीं है तो भगवान किसी को क्यों मारे अगर मार रहे हैं तो भगवान नहीं है तो हमारी कहाँ पे गलत फहमी है उस गलत फहमी को दादा भगवान ने बहुत अच्छी तरह बताया मैं बताऊं दो चार लाइन में खाली भ्रांति से भगवान है करता भ्रांति से भगवान है करता हकीकत में कुछ और है हकीकत में कुछ और है संयोगी पूर्ण पुरावा करता संयोगी पुरावा करता बाकी पोलम पोल है बाकी पोलम पोल है विनाशी चीज पूर्ण गलन है विनाशी चीज पूर्ण गलन है अविनाशी भगवान है अविनाशी भगवान है धर्म स्वरूप संसार लीला है धर्म स्वरूप संसार लीला है मर्म स्वरूप भगवान है मर्म स्वरूप भगवान है कुदरती रच રચના પૂર્ણ વ્યવસ્થિત કુદરતી રચના પૂર્ણ વ્યવસ્થિત સમજેવો ભગવાન હૈ સમજેવો ભગવાન હૈ ઝૂમ ઝૂમ કે ઝૂમ ઝૂમ કે ઝૂમ ઝૂમ ઝૂમ ઝૂમ सभी मिल गाउदुम प्रगट दादा की बानी सुन अब ये ये हम मान रहे हैं और वास्तविकता ये है ये क्यों जो बनी घटना वो लिखी गई है कही गई है लेकिन उसके पीछे का जो हार्द है वह कुछ और है हम कुछ और मान रहे हैं तो सवाल ये आता है कि कर्म क्या है और कर्म फल क्या है जीवन में पहले क्षण से अंतिम क्षण तक का जो हमारी आंख से दिखता है वो सारा कर्म फल है और कर्म फल डिसाइडेड भाग में आता है लेकिन वो कर्म फल भोगते समय मैंने क्या डिसीजन लिया जिसको भाव सत्ता कहते हैं मेरा क्या भाव है वो कर्म है जहाँ पर मेरी स्वतंत्र सत्ता है मान लो मेरे घर में मेहमान आए आर्य संस्कार के हिसाब से मैंने उसका स्वागत किया लेकिन मन में क्या आया कि ये तो कोई समय है उनका आने का मैं उनको पांच पकवान खिला रहा हूँ लेकिन मुझे फल क्या मिलेगा जो मेरे भाव हैं उस तरह का मुझे फल मिलेगा और जबकि अगर मेरे भाव अच्छे हैं उस तरह का फल मिलेगा जबकि क्रिया वो एक ही है तो भाव परिवर्तन भाव परिवर्तन उस वैज्ञानिक समझ के आधार पर मेरे में मेरे वो भाव बदल सकते हैं वो क्या वैज्ञानिक समझ है कैसे बदलेंगे तो हम ये कहेंगे जैसे मैंने कहा कि पेपर उसने डाला है मुझे पता है मैं उसका पेपर का बिल चुकाता हूँ मुझे दुख नहीं होता है लेकिन कोई मांगने वाला किसी ने मेरा पैसा ले लिया किसी ने मेरा नुकसान कराया है लेकिन उसको मैं भूल नहीं सकता हूँ किसी ने मुझे गाली दी है मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ मेरे संबंधी के साथ में कोई विश्वासघात हो गया है उसे भूल नहीं सकता हूँ क्यों कि मुझे मालूम नहीं है कि यह काम मैंने आगे किया है मुझे उसकी जानकारी आज नहीं है लेकिन अगर मैंने नहीं किया है तो कोई जीव कभी किसी जीव के अंदर दखल कर ही नहीं सकता है और जो कर सकता होता तो मेरे पिताजी को मैंने दो श्वास दे के उनको जिंदा रखा होता मेरे को मेरी श्वास लेनी पड़ती है उनको उनकी श्वास लेनी पड़ती है सबका जीवन स्वतंत्र है पर कनेक्टेड है इंटरकनेक्टेड है इन रिलेशन में और ये जो रिलेशनशिप है कितना बड़ा व्याप है सारा विश्व के साथ में मेरी रिलेशनशिप है ये जब मेरी रिलेशनशिप मुझे ख़त्म समझ में आएगी तो मुझे मेरी जो उंगली है वो किसी को दोषी देखने की जगह मैं अपने अंदर ढूंढूंगा क्योंकि किसी की अगर स्वतंत्र सत्ता नहीं है और मुझे दुख मुझे मिलता है किसी चीज़ से तो मेरे ही किसी कारण का परिणाम है परम पूज्य दादा भगवान ने इसके लिए उन्होंने कहा एडजस्ट एवरीवेयर क्यों कि एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा मुझे यह पत्नी क्यों मिली है मुझे ये समाज क्यों मिला है मुझे ये फ़र्ज़ क्यों मिला है मेरा ये फ़र्ज ये फ़र्जियात है उसमें मर्जी नहीं है लेकिन मेरा जो डिसीजन है <coughs> मैं कौन हूँ और फ़र्ज करने वाला कौन है और उनसे अलग होके मैं निष्पक्ष होके <coughs> उसी फ़र्ज को मैं निभाता हूँ तो मैं अंदर से बाहर से सब कुछ होने ताप होने के बावजूद अंदर से मैं सुखी और अबाधित सुख का अनुभव कर सकूंगा सुख मेरा स्वभाव है सुख मेरा धर्म है सिर्फ वह एक मेरी गैर समझ के कारण से मेरी जो समझ सही नहीं होने के कारण से उसका मुझे अनुभव नहीं होता है सिर्फ इस वैज्ञानिक समझ को मैं उस रूप में लूँ तो मुझे मालूम पड़ेगा मैं भुगतता हूँ तो भुगतना क्यों है कोई भी सृष्टि में कोई भी काम अचानक एक्सीडेंटल नहीं होता है मुझे लगता है एक्सीडेंट है कोई मुझे पैसा लेने आता है या मेरा पैसा नुकसान करता है वो एक्सीडेंटल नहीं है फिर भी ये बोलने की चीज़ नहीं है क्योंकि जो मैं लेकर आया हूँ जो मेरा बाह्यक जो मेरा का जो मेरा शरीर है जो काम कर रहा है उन सब के सभी फर्ज के होने के बावजूद मैं अंदर से मैं निष्काम कर्म की तरफ और निष्काम कर्म के ऊपर मेरी श्रद्धा के साथ मैं जिंदा रहूं और मैं आगे बढ़ूं यह रामायण और महाभारत का संदेश है जो कृष्ण भगवान और राम भगवान ने जी कर दिया है उसको जीकर दिखाया है और ऐसे ही दृष्टांत पुरुष युगों युगों में एक दो होते हैं उन्हीं के कारण से हमें वह दृष्टांत आगे मिलता है अब हम एक साहब एक प्लीज अति सौभाग्य की बात है दादा भगवान ने या तो ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञानी पुरुष जिसे हम आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं आत्मज्ञानी पुरुष किसी का अहंकार को आइए इस तरफ आ जाइए बहन जी इस तरफ आइए आइए प्लीज़ आइए यहाँ पे आगे भी जगह है ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अलवर भूमि पर ऐसा सत्संग रखना ये भी हमारा पहली बार ऐसे तो हम सत्संग कॉलेजों में स्कूल में अलवर कॉलेज में स्कूल में जा चुके कर चुके हैं और वो करने का फल हमें क्या मिला जब हम कॉलेज के बच्चों के साथ बात किया स्कूल में बच्चों के साथ बात करने के बाद हमें फल क्या मिला आज हमने एक ऐसे कंपटीशन रखा था सब्जेक्ट था एडजस्ट एवरीवेयर इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जो समझ में जैसा समझ में आया उन्होंने लिख के दिया बड़ा बॉक्स फाइल बन गया और सभी बच्चे ढाई से साढ़े तीन बजे यहाँ पर ही थे हमने प्राइज और सभी को हमने मोटिवेट करने के लिए सभी को प्राइज दिया इसका कारण क्या है एडजस्ट एवरीवेयर दादा भगवान ने या तो सभी धर्मों में ये बात कहा है मगर इसके ऊपर लिख कर लाना और वो भी स्कूल और कॉलेज के बच्चे अपने आप फिर भले चाहे उन्होंने अपने पिता माता पिता की के साथ ये सहयोग किया हो मगर लिखना देना उस बच्चों की हिम्मत को उस बच्चों की शक्ति को हमारा नमस्कार है क्योंकि सबके बीच में खड़ा होकर बोलना ये भी एक डर लगता है क्योंकि लोगों की इतनी आंख मेरे ऊपर है तो मेरा क्या होगा मगर ज्ञानी पुरुष एक पुरुष ऐसे भी है जितनी आंखें मिले उस सभी आंखों में खुद ही का दर्शन करे उनको डर तो नहीं लगे मगर जितनी आंखें दिखाई दे सभी आंखों में खुद का दर्शन करके कहते कि वो अलग नहीं है मैं खुद हूं क्योंकि कृष्ण भगवान रामायण में राम भगवान स्टोरी हमने बहुत सुनी टीवी पे उनकी सीरियल भी देखी फिर भी एक बात अभी भी कम रह जाती है रामायण में राम भगवान ने क्या प्राप्त किया था लड़ाई की युद्ध किया फिर भी भगवान कहलाए कृष्ण भगवान महाभारत में ऐसा उन्होंने कृष्ण भगवान के पास क्या था लड़ाई किया युद्ध किया फिर भी कृष्ण भगवान भगवान कहलाए और हम लड़ाई नहीं करते युद्ध नहीं करते किसी को काटते नहीं है मारते नहीं है फिर भी हम भगवान तो नहीं कहलाते हैं मगर इंसान कहे या न कहे उसमें भी शक खड़ा हो जाता है तब जाके चार लाइन एक भक्ति की चार लाइन आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और हम साथ में कहेंगे उसके बाद मैं पवन जी दृष्टि बिंदु के अनुसार दृष्टि बिंदु के अनुसार सब ही धर्मों को आ सब है सच्चे अपनी जगह पे सब है सच्चे उत्क्रांति के नियम से चलते उत्क्रांति के नियम से चलते रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो कौन है खुद वह दिल से सोचो कौन है खुद वो दिल से सोचो अंत स्थल के भीतर को खोदो अंत स्थल के भीतर को खोदो अंत स्थल के भीतर को खोदो अंत स्थल के भीतर को खोदो हाँ जी कृष्ण भगवान ने अपनी ब्लंडर्स निकाल दी और ब्लंडर्स निकालने के बाद सभी गलतियां भी निकाल दी राम भगवान ने अपनी ब्लंडर्स निकाल दी सारी गलतियां भी निकाल दी ये करने के बाद इतना बड़ा कार्य युद्ध का वनवास का होते हुए भी हमारे दिल में उनके प्रति पूज्यता है क्योंकि सबसे पहले ब्लंडर्स ब्लंडर्स मतलब क्या है तो ब्लंडर्स एक ही है मैं खुद कौन हूं जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान रहा हूं कि यह मैं खुद हूं जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान रहा हूं कि यह मैं खुद हूं और जो मैं हूं उसकी पहचान नहीं है उसको ब्लंडर्स कहा और ब्लंडर्स की वजह से हर पल हर क्षण हम गलतियों से भरे हैं हाँ वाकई हम ये भी मानते हैं कि हमारे में गलती एक भी नहीं है जो भी गलती है सामने वाले में है जब ब्लंडर्स निकल जाने के बाद कृष्ण भगवान और राम भगवान एक ही कहा सभी निर्दोष है सिर्फ हम ही गलतियों से भरे हैं और हम हम उससे उल्टा बोलते हैं मैं एक ही निर्दोष हूं बाकी सब कसूरवार है क्योंकि हमारे भीतर ना तो ब्लंडर्स गया और ब्लंडर्स न जाने की वजह से एक भी गलती हम मनुष्य जन्म में आने के बाद कम तो न कर सके मगर दिन ब दिन आयुष्य बढ़ता है वैसे गलती भी हमारे भीतर बढ़ती ही जा रही है और गलती बढ़ने पर क्या होता है तो क्या मनुष्य जन्म नहीं मिले तो गलती से मुक्त कैसे हो जाओ भाई साहब ब्लंडर से मुक्त हो जाओ मैं खुद कौन हूं मेरा स्वरूप असली क्या है वो पहचान लो तो आप मुक्त हो गए ब्लंडर से छूट गए तो गलतियों से छूटना आसान हो जाएगा और यही बात बहुत अच्छी तरह क्योंकि मैं बहुत बार सोचता था कि कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र डाला उसका सिर काटा और वापस सुदर्शन चक्र उसकी उंगली में आ गया फिर भी उसको किसी ने नहीं पकड़ा आज के ज़माने में अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे साथ क्या करोगे आप लोग कोई अपमान करे और उसका सिर काटना गर्दन काटना ये किसी भगवान का कार्य नहीं है तो फिर कृष्ण भगवान तो ऐसे कार्य कैसे कर सकते हैं मगर हम कलयुग के लोग हिंसा को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान का सुदर्शन दूसरे को ठंडक देने के लिए था दूसरे को भगवान बनाने के लिए था और ये कलयुग में हमें क्या देखने को मिला सुदर्शन से गला काट रहे हैं नहीं साहब कृष्ण भगवान की ये हालत कर दी हम लोग ने हम खुद जिसको मानते हैं उसी भगवान की सही पहचान नहीं है तो हमारी खुद की पहचान तो कैसे करेंगे हम खुद की पहचान तो इतना ही जानते हैं जो नाम मिला और लोगों ने मिलकर मुझे प्रतिष्ठा दी वो ही मैं सब कुछ हूं भगवान ने कहा ये भी धोखा देगा इसके लिए कहा यह विश्व फंसा है माया में यह शरीर भी अपना ही नहीं मैं शरीर हूँ वह है जीव का हम रचता है जगत जीव देखो अनुभव कहता है हमको अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो खुद अपनी गलती देखो दूसरों की गलती न देखो दूसरों की गलती न देखो भूल है तो सजा खुद भोगो भूल है तो सजा खुद भोगो हाँ जी अलवर क्षेत्र से हमने जिस को आमंत्रित किया था वो सभी यहाँ पर पधारे हैं हम सही हृदय से उनके आभारी हैं मैं पवन जी से कहूँगा दादाजी से उनकी पहचान कराएं दादाजी का दर्शन कराए पवन जी से मैं नम्र विनंती करता हूँ साहब धन्यवाद आप सबका कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहूँगा अलवर शहर की तरफ से शहर विधायक श्री बनवारी लाल जी सिंघल यहाँ मौजूद हैं वो दादाजी का माल्यार्पण कर स्वागत करें श्री बनवारी लाल जी सिंघल एक बार स्टेज पर पधारें हाँ जी जरूर पधारे स्टेज पर हमारा अहोभाग्य आप हमारे प्रसंग में यहाँ पर पधारे और पवन जी साथ में रहिए आपको बनवारी लाल जी आप यहाँ ये अलवर में और पूरा अलवर का इलाके के लिए यहाँ आपका संप <clears throat> छोटे से लेके सभी लोग का बहुत हम यहाँ तीन दिन थे है देख रहा हूँ और <clears throat> अपने गांव में से आए वो सभी उन्हें उल्लास हो रहा है कि हम हमसे मिलते हैं और हमें एक दूसरे से एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है अवसर मिलता है और ये आपने ऑर्गेनाइज़ किया है पवन जी उसके लिए धन्यवाद है और आपको मेरा खूब खूब आशीर्वाद हम्म, खूब खूब आशीर्वाद आपका चल रहा है माइक दादी जी माला पहनाएंगे तो हाँ जी श्रीमती सिंगल जी भी भाई साहब के साथ पधारी हुई हैं वो भी दादाजी का माल्यार्पण कर स्वागत करना चाहेंगी मित्तल हॉस्पिटल से डॉक्टर एस सी मित्तल जो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो और मैडम मित्तल दोनों एक बार स्टेज पर आकर हम मैं सभी से गुजारिश करूंगा विनती करूंगा बनवारी लाल जी साहब सभी डॉक्टर साहब सबको हमारी किताब जरूर आप उपयोग में लेना हम बहुत आप, आपके आभारी हैं आपका समय निकाल कर हम आपने हमारे ये प्रसंग में आप उपस्थित रहे डॉक्टर साहब है ना doctor S C Mittal doctor S C Mittal धर्म और समाज में बहुत हमेशा अग्रणीय रहते हैं समाज सेवा में डॉक्टर की सेवा तो है दादाजी उसके अलावा धर्म और सम, धर्म और समाज में भी सेवा में हमेशा आगे रहता इसको जीने का हक है हो गया प्लीज़ दादाजी का कॉलर माइक स्टार्ट करना साहब कॉलर माइक ऑन नहीं है हम ऐसे नहीं हमारे भारतीय जीवन में हम वैसे तो नहीं बोलेंगे कि जीवन हमेरा खुद का हमेरा ही है वो तो सारा विश्व में सभी का जीवन है तो जीवन जो है उसमें यहाँ सभी का अनुभव है इतिहास भी है लेकिन इतिहास में कहीं कहीं का इंटरेस्ट होता रहता है उसी कारण समय समय पर इतिहास में बदलाव आते हैं जल्दी तो नहीं आते बहुत समय लगता है तो कभी ऐसा समय आता है कि सभी लोग अपने खुद को समझे और खुद को समझ के हम जहाँ भी है वो उनके हित के कारण जहाँ भी हो देश हो समाज हो कुटुंब हो व्यक्ति हो और इसी तरह खुद का जीवन समझ के जो बिताए तो, तो बड़ा अच्छा और आपका तो मेडिसिन का तो उनकी सेवा तो आदरणीय है खूब आशीर्वाद है मुझे पवन जी ने बताया यहाँ कब रोटरी क्लब अलवर के अध्यक्ष श्री सुनील भतिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी रोटरी क्लब की तरफ से दादाजी का माल्यार्पण कर स्वागत करें पूर्व प्रांतपाल क्रांति मेहता जी भी अगर मौजूद हैं કેટલા છે કેટલા છે रोटरी क्लब अध्यक्ष कहाँ मैं सेक्रेटरी सुरेश गोयल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक बार तुरंत स्टेज पर आ जाएं। वेलकम रोटेरियन सर आप सर्कल के गवर्नर हैं हाँ? मैं प्रेसिडेंट हूँ प्रेसिडेंट हाँ तो अच्छा है और रोटेरियन जो संस्था है और मानव समाज के कल्याण के लिए कहीं कई ढंग से उसकी सेवा उनकी मिलती रहती है कई ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं कहीं कई तरह से तो मेरी तो आपको एक विनती रहेगी कि इस समाज में हमें जीने जीने में अवकाश ही नहीं मिलता सही ढंग से खुद अपने लिए जी सके उसके लिए भी होगा तो बड़ा अच्छा रहेगा और बहुत बहुत धन्यवाद है रोटरी कप तो सारा इन, सारा स्वदेश में और इंटरनेशनली फेमस है बड़ी अच्छी बात है रोटरी क्लब सेक्रेटरी सुरेश भाई सेक्रेटरी हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं खूब आशीर्वाद उन्नति करो हुँ? हम्म? ये कंधे पर बिना बोझ वाला बोझा उठा लो हुँ? हम्म? ये कंधे पर हम्म। बिना बोझ वाला जिसको बोझा जीवन रूप लगता है जीवन मेरा बोझा रूप है उसका बोझा उठा लो इतना ही करना हाँ बहन ठीक है ना श्रीमती जी हाँ जय सच्चिदान बहन भारतीय नारी है आर्य नारी आर शब्द वो जूना हो गया है हम जर्मनी में थे तब एक बड़ा लेखक हमें मिला तो और उनकी धर्मपत्नी आई है मेरे पास धर्मपत्नी का नाम तो ऐसा अपना यहाँ का सरखा लगता था लेकिन जो जर्मन थे उसने यहाँ भारत के बहुत अभ्यास किया जैनों को मिले आचार्यों को मिले और तत्वार्थ सूत्र का सही ढंग से इंग्लिश में और जर्मनी में अनुवाद किया अनुवाद किया तब मुझे उनसे बात हुई कि लोग वेस्टर्न में पश्चिम में लोग मानते हैं कि आर्यन आर्य एक रेस है ऐसा नहीं है ये रेस नहीं है वो तो एक जीने की रीति है जीने की रीति वो तो सभी जगह हो सकती है अपने खुद सुख के लिए जीवे और किसी को हमसे दुख न पहुँचे ऐसा जियो ने सबको हक है राइट है जीने का यही है इसीलिए आप सबको इतना संदेशा भेजो कि लीव एंड लेट लीव हाँ चलो रोटरी के पूर्व प्रांत पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अच्छा। क्रांति अच्छा? अरे वाह उन्होंने अपने इनकम टैक्स की फाइल जो डीजी में कराया था अच्छा अच्छा अच्छा खूब आशीर्वाद खूब आशीर्वाद मेरा धन्यवाद है सुबह मिलेंगे जी हाँ हाँ मैं दादा भगवान ट्रस्ट की तरफ से महात्मा रामोदार आलोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दादा के स्वागत में भाषण दें और अपना अभिनंदन पत्र जो वो तैयार करके लाए दादाजी के लिए उसको लेकर आ जाए स्टेज पर इसके बाद जिनके प्रश्न हों वो प्रश्न स्टेज तक पहुंचा दें प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम होंगे जिनके प्रश्न हो वो स्टेज तक पहुंचा दें सारा विश्व में अगर ये एक नई मानव सभी मनुष्यों को जीवन जीने की रीत खुली हुई है नई जो सभी युगों को सम टोटल सरवाना के रूप में ये बड़ी अच्छी है उसमें एक बात बहुत अहम है क्या एक मनुष्य बोलता है सुनते हैं उसको वाणी बोलते हैं स्पीच बोलते हैं तो मनुष्य का अधिकार बोलने का है वैसे समाज में जो देखे तो सबका अधिकार है बोलना नहीं होता कैसे होता बोलेंगे तो एक दूसरे का सुधार आएगा लेकिन उसके पीछे एक सिद्धांत है बहुत अच्छा विज्ञान का सिद्धांत है कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी अगले जन्म की जो मन के स्तर पर अभिप्राय के कारण और वहाँ अभिप्राय के कारण जो मन के स्तर पर स्पंदन होते हैं मनुष्य देह में ही तभी उसी वक्त वो एक आवाज़ आवाज़ न शरीर का गुण है न आत्मा का न ब्रह्म का आवाज़ दो वस्तु सामने आती है जड़ जिसको बोलते हैं तो एक दूसरे दूसरे से मॉलिकुल स्वरूप में कुदरत में सभी जगह इसी टकराती है तो ये आवाज़ निकलता है आवाज़ की ये बात है इसी कारण मनुष्य जीते जीते खुद बोलता बोलता एक अपनी रिकॉर्ड बना देता है वो रिकॉर्ड लाइफ लॉन्ग जन्म से ही है जन्म से ही है होती ही है वो तो तो रिकॉर्ड है इसीलिए ये वाणी निकलती है इसीलिए दादा भगवान ने बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया और ये सिद्धांत जिसको जिसको समझ में आवे वो तो सुखी हो जाएंगे कहाँ भी होंगे किसी धर्म के कोई भी हो कि वाणी टेप रिकॉर्ड है टैप हम कर लेते हैं सब कुछ है बारी सब बोले सब सभी तो टैप है तो टैप रखते हैं तो सुन सुनाई पड़ता है लेकिन वाणी टैप रिकॉर्ड अर्थात आगे टैप हो गई थी तब जो हम थे और आज जन्म के पश्चात सारा आखिर तक वो चलती रहती है वो जो हम है आज वो दोनों में फर्क हो जाता है इसीलिए जीवन में समस्याएं बनी रहती है सबको आगे थे वो आज नहीं है और आज है वो आगे थे और आगे थे इसीलिए आज है और आज है तो हमारे आगे का सभी रोड मैप रास्ता तय कर लेते हैं और तब तय करने समय नहीं लेकिन आएगा तब है तो दोनों अलग है ये सबसे बड़ी समस्या है लेकिन स्पीच और बोलने के बारे में इतना समझ ले कि अभी आपको लगता होगा मैं बोलता हूँ एक शब्द मुझसे ना निकल पाएगा कोई एक शब्द भी नहीं तो क्या निकलता है तो कि मेरी आगे की टैप बज रही है और कुछ नहीं है उसमें शरीर में सभी अरेंजमेंट है सभी अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट से निकल जाता है सब कुछ शब्द और ये तो समझ में आए ऐसी बात है कोई अच्छे अच्छे बुद्धि वाले कहीं कहीं वकीलों अच्छे अच्छे लोग कोर्ट में एक दूसरे के साथ वो आर्ग्यूमेंट करते हैं मारे दुख થાકી જવાય છે એને કહેજો अभी ये शरीर नरम है ना भाई साहब तो <laughs> ऐसा नहीं नहीं तो मैं अब सबको नमेला ही हूँ हमेशा हाँ इन को क्यों आते हैं हमें मिले हैं दो तीन दिन तक उन्हें बहुत आनंद आता है कि हमें देखते हैं तो वो वो समझते हैं कि हम खुद को ही देखते हैं ऐसा उसका स्वाद है सभी का हुँ? तो ये वाणी का सिद्धांत जो है वो वाणी किसी की सत्ता की बाबत नहीं है लेकिन खुद की तैयार की हो, हो ही गई हुई वो रेकॉर्ड बस्ती है बड़ा सिद्धांत है आगे कोई है बीजों दादाजी अलवर के संपति ताराचंद जी खंडेलवाल साफा पहनाकर स्वागत करना चाहेंगे तारक जी हाँ ये बड़े बड़े भावुक है मेरे तारक जी राम प्रसाद जी राम प्रसाद रावतार आलोक जी हाँ राम प्रसाद हाँ नाम क्या है उनका ताराचंद जी रामोतार आलोक हाँ? रामोतार आलोक आलोक तो आपका स्पेशल नाम है रामावतार है रामावतार राम के अवतार <laughs> अरे वाह आसन बहुत भावुक है बड़े अच्छे हैं और उन्हें जो आनंद आया है खुद का आत्मा का खुद का आत्मा का और आत्मा शब्द तो उन्होंने इच्छा हुई है कि करुण दादाजी आए हैं तो मेरी थोड़ी छोटी सी रचना हो गई मैं बोलूँ उसके लिए ये रजा मांगते हैं आप देखो हाँ स्वागत अब जी स्वागत मैं तो चाहूँगा कि आप में से जो जिसको जो पूछना चाहे जो पूछो कोई ऐसे उसमें कोई बात नहीं होता और यहाँ से आपको जवाब मिलते रहे और आपको समझ मिली तो आपका समाधान भी हो सकता है हकीकत में हमारी जानकारी मनुष्य की मनुष्य के जीवन के लिए बहनों को भाइयों सभी को वो जानकारी खुद को जो समझदार पर समझदार है उनसे जो समझदार नहीं है वो पूछते हैं समझने के लिए ऐसा एक प्रश्नोत्तरी प्रश्न पूछता है जवाब मिलता है सभी शास्त्रों ऐसे ही हुए हैं अब देखो प्रश्न और उत्तर तो ऐसा होगा तो ताबड़ तो मिलेगा अच्छा क्या आलोक जी चलाओ हाँ बोलो हाँ, दीपक દીબો हाँ वो ले लो ये बस मुझे अभी તબિયત नहीं सारी ले लो आप लोगों को मेरी नम्र विनती है हमारे तारा ताराचंद जी ने पवन कुमार ने पूरा फैमिली और अलवर के सही मुमुक्षुओं और शुभ चिंतकों और उसको ऐसा हुआ तो आज आए हैं दूर से तो सबको आपका लाभ मिले लेकिन हमें दुख होता है आपको बताने में कि मैं शरीर को चला तो नहीं सकता लेकिन शरीर मशीन थोड़ा नरम पड़ा है <laughs> आप समझे न इसीलिए हमें माफ करें सब जय सचिदानंद दादा भगवान ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब इंसान अपनी सारी गलतियों को निकाल देता है अंतिम गलती भी निकाल देता है तो वो इंसान से भगवान बन जाता है और गलतियाँ निकालने के बाद आदमी स्वतः ही भगवान बन जाता है मैं पूज्य परम पूज्य गुरु जी कन्नू दादा जी को चार पंक्तियाँ सम, समर्पित कर रहा हूँ कन्नू दादा पीछे कन्नू दादा सारे जहाँ से कन्नू दादा सारे जहाँ से तेरा जलवा हुआ निहाल देखा कल कन्नू दादा सारे जहाँ से तेरा जलवा कमाल देखा हर कोई तेरे दर से हर कोई तेरे दर से जाता हुआ निहाल देखा मैंने अपनी इन आँखों से मैंने अपनी इन आँखों से एक ऐसा इंसान देखा जिसके बारे में कहते हैं कि धरती पर कन्नू दादा जैसा भगवान देखा कन्नू दादा सारे जहाँ से मैंने तेरा जलवा कमाल देखा हर कोई तेरे दर से जाता हुआ निहाल देखा मैंने अपनी इन आँखों से एक ऐसा इंसान देखा जिसके बारे में सारी दुनिया कहती है कि धरती पर कन्नू दादा जैसा भगवान देखा दूसरी अभिव्यक्ति गौर कीजिए जिन चरणों की धूली से जिन चरणों की धूली से माटी बन जाती चंदन जिन चरणों की धूली से माटी बन जाती चंदन आज आज उन्हीं चरणों की आज उन्हीं चरणों की रथ से संस्कार सनातन केंद्र अलवर मैके का बनकर उपवन जिन चरणों की धूल से माटी बन जाती चंदन आज उन्हीं चरणों की रथ से संस्कार सनातन केंद्र मैके का बनकर उपवन कन्नू दादा आप वो कन्नू दादा आप वो दीपक हैं जिसके पीछे विश्व में अक्राम विज्ञान का प्रकाश ब्रह्मांड में फैलेगा कन्नू दादा आप वो दीपक हैं जिसके पीछे विश्व में अक्रम विज्ञान का प्रकाश ब्रह्मांड में फैलेगा आप वो सूरज हैं जिसके पीछे आकाश चलेगा जिस पर दादा कन्नू दादा जिस पर कन्नू दादा आप कदम रख दोगे वह एक एक नया इतिहास बनेगा जिस पर जहाँ एक कदम रख दोगे कन्नू दादा वह एक नया इतिहास बनेगा अलवर में जो पवित्र कदम रखे हैं अलवर में जो पवित्र कदम रखे हैं स्वय संस्कार बनाने का और जो उद्घाटन किया है उत्तरी भारत के हिंदी भाइयों का सबसे बड़ा केंद्र वो भी एक इतिहास बनेगा वो भी एक इतिहास बनेगा कन्नू दादा जहाँ आप कदम रखेंगे वह एक इतिहास बनेगा अब मैं आपके सामने उनके लिए एक अभिनंदन पत्र तैयार किया है जिसमें कन्नू दादा जी का हर शब्द में उनका प्राकट्य स्वरूप प्रकट होता हुआ आपको दिखेगा श्री स्वामी भगवान का श्री स्वामी भगवान ना असीम जय जयकार हो नमो वीतरागाय नमे दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो संसार विघ्न निवारक संसार विघ्न निवारक निष्पक्षपाती आत्मोल्लास आत्मोल्लासक ज्ञानी पुरुष आप अक्रम विज्ञानी कांत दृष्टा कल्प गुरुदेव परम पूजनीय श्री कन्नू दादा भगवान के दिनांक 14 अप्रैल से 2015-17 तक राजस्थान के सिंह द्वार अलवर प्रवास पर परा श्रद्धा परा भक्ति के साथ पधारे हैं उन्हें प्रणाम चरण वंदन परम पूज्य गुरुदेव आप अक्रम विज्ञान के अनुपम ऐश्वर्य को आविष्कृत कर सहजानंद में ले जाने वाले दिव्य ज्योतिर्धर मनो मनोधारक हैं आपके अलवर में दादा भगवान सर्व कल्याण ट्रस्ट अलवर द्वारा नवनिर्मित स्व सत्संग भवन सनातन संस्कार केंद्र के उद्घाटन के भव्य समारोह के पावन शुभ अवसर पर आपने पधार कर हमारे उत्साह उमंग में जो अभिवृद्धि की है वह चिर स्मरणीय है इस अवसर पर हम सभी सेवक महात्मा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और अभिवादन करते हैं हे दिव्य पुरुष जिस प्रकार संगीत सात स्वरों से इंद्रधनुष सात रंगों में शोभायमान होकर परिपूर्ण होता है उसी प्रकार आपके अक्रम विज्ञान के प्राकट्य ने आपके अनुभव दर्शन तथा क्रियाकारी संस्पर्श ने जिज्ञासुओं मुमुक्षुओं और आध्यात्मिक प्रगति को जोश प्रदान किया है आप भगवान के तत्व दर्शन के प्रतिबिंब हैं आपके श्री मुख से जन जन को दी अमृत देशना तत्व रूप में सर्वकाल सर्वांग सनातन सुख देने वाली है आप जैसे महामना के सुसानिध्य में हमें चारित्र पालन का सुअवसर प्राप्त हुआ है तभी तो कहा गया है ध्यान मूलम मूर्ति ध्यान मूलम मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम शास्त्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु गुरु पदम शास्त्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा श्रीमद् भगवत भगवत में ऐसे महापुरुषों को देव स्वरूप कहा है <clears throat> आप परम बांधव हैं और साक्षात भगवत स्वरूप हैं देवता बांधव संत और आत्माएं आपके सानिध्य में सुप्रकाशित हैं आपकी दृष्टि परम उदार है साथ ही सत्यान्वेषक भी सत्यान्वेषण करते हुए आपकी दृष्टि में घर दृष्टि में पर पर नहीं रहता स्वय स्वय नहीं रहता आपके व्यवहार में परम मृदु आचार मैं परम निष्ठावान विचार में परम उदारता है आपका संपूर्ण जीवन आचार दर्शन का व्याख्याता है आप द्वारा प्रदत्त ज्ञान सम्यक जीवन का अक्षय प्रकाश है आपका नाम मनुष्यता को आनंद का संदेश है जिस क्षण आपका स्मरण किया गुणगान किया वह क्षण कालजयी बन जाता है आपका हर प्रदत्त ज्ञान सम्यक जीवन का अक्षय प्रकाश है आपका नाम मनुष्यता को आनंद का संदेश देना है जिस क्षण आपका स्मरण किया जाता है गुणगान किया जाता है वही क्षण कालजयी बन जाता है आप श्री की सेवा में पुनः नमन वंदन करते हुए आपकी दीर्घायु के लिए हम कामना करते हैं सह प्रेम भेंट दादा भगवान सर्व कल, कल्याणकारी ट्रस्ट संस्कार केंद्र के संघपति अध्यक्ष मंत्रीगण कार्यकारिणी एवं समस्त महात्मागण और प्रस्तुति विनीत सेवक महात्मा कवि डॉक्टर रामावतार शर्मा आलोक जय सच्चिदानंद खूब धन्यवाद आपको आलोक जी खूब धन्यवाद वो आप सर्व के तरफ से सारे अलवर से सभी के तरफ से ये हमें अभिवादन करते हैं और हम आपसे हमें तो खुद को खूब धन्यवाद समझते हैं हमें कोई अभिवादन की ज़रूर नहीं फिर भी व्यवहार तो व्यवहार है वो तो रहेगा वो तो मानव समाज है कि नहीं तो होना वाला है लेकिन मैंने देखा यहाँ कि यहाँ जीवन की शैली है वो बहुत करके सरलता वाली है सरलता वाली आपका पुत्र साहब आपको क्या लगता है सरलता वाली सब लोग हाँ पढ़े न पढ़े सभी सभी समझ तो समझ जाते हैं ज्ञान ऐसा गहरा और डिफिकल्ट है ही नहीं ज्ञान तो खुद खुद की समझ होती है खुद खुद की खुद के लिए समझ मिले जहाँ से मिले उनसे हमें आदर कर लेते हैं और कुछ नहीं है तो सर तबीयत बहुत है जाने दो पगड़ी का सामान कौन करना चाहते हैं ये लोग बोल बोलते हुए क्या करो थोड़ा हाँ लाओ लाओ हाँ, ये यहाँ से थोड़े प्रश्न आए हैं तो हम ये प्रश्न लें और अच्छा अच्छा उसका हमें एक दूसरे के लिए समझ के आदान प्रदान हो इसके लिए हम आपके साथ है एक प्रश्न है प्रश्न में सुख क्या है वो तो साहब ने बताया सुख सुख मानव का खुद का उनके अंदर भगवान को जो जो रूप से माने सारा विश्व में उनका जो भी विश्वास है फेद है वो फेद से जो भी माने उसमें सारा मान्यता के अनुसार जो बांटा गया है भगवान को वो तो बराबर है वो तो समाज में होने ही वाला है लेकिन हकीकत में वो एक ही भगवान का है जैसे सोने के गहने बहुत बहुत प्रकार के बनते हैं हरेक में सोना है और ये सोना उसका गुण एक ही है सभी में और आत्मा इस प्रकार की है इसी प्रकार की हम सोने के सिक्के की एक हीप है डग डग है बस और हम पूछे जो प्रश्न है उनको कि क्या है तो जवाब तो आपका यही आएगा कि तो सोना है तो दग में से एक सिक, सिक्का लेके मैं पूछता हूँ कि क्या है तो सोना है तो साहब ने बताया कि बीज में से वृक्ष वृक्ष में से बीज लेकिन भगवान का स्वभाव एक ही रहता है जैसा देह शरीर अलग अलग ढंग से सभी सकार होता है सभी इंसानों में उससे भगवान अलग नहीं हो जाते नहीं कभी नहीं हो जाते सभी धर्मों में यही समझ तो है ही उसे लेकिन जो भगवान के बारे में है अपनी मान्यता के अनुसार जीवन जाता है उसमें ज़रूर फर्क पड़ना है क्योंकि ये विश्व तो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है भारत भी बहुत बड़ा है एक ही भारत में और कोई भी देश हो सभी जगह यही है तो आज ये इंसान इंसान से इंसान बंटवारा से अलग हो जाता है उसमें आज की समस्याएँ पड़ी हुई है हकीकत में सुख अपना स्वभाव है सुख अपना स्वभाव है कितना और कौन सा सुख तो अनंत सुख इनफाइनाइट ब्लिस ब्लिस बोलते हैं और ब्लिस तो सभी लोग समझिए सभी धर्मों में और कोई भी संत पुरुष हो किसी भी हो तो उनकी हमें कृपा दृष्टि मिलती है दुआ मिलती है तो सभी लोगों को जो दुख है वो भी हल्का हो जाता है तो सुख का सुख की व्याख्या ये है कि एक दफ़े सुख चख लिया वो शरीर सुख दुख के अधीन है फिर भी जो सच्चा सुख चखा अंदर आत्मा का आत्मा का तो उसके पीछे दुख आएगा ही नहीं और जे व्यवहार में लोक में समाज में जो हमारा कल्प कल्प कल्पा गया है सुख है जिसको पास जाते हैं वो सुख है इसीलिए उसके पीछे दुख आना ही है तो जो सुख के पीछे दुख नहीं आता वही सही सुख है सच्चे सुगुरु सच्चे गुरु की पहचान क्या है सच्चे गुरु की पहचान ये है कि आप जो कुछ मिले उसको गुरु समझ के उनको मिलो तो वो ये आपको महसूस होगा कि ये बड़ा नहीं है गुरु महीना बड़ा नहीं है वो आपसे छोटे हैं और हमेशा बात करते रहते हैं ऐसा उसका लघु भाव है इंग्लिश में उसको ह्यूमिलिटी बोलते हैं तो ये प्रथम भूमिका है हर एक को अपने जीवन को समझने में भगवान को समझने में कि टोटल ह्यूमिलिटी से किसी को संत के पास जाओ कहाँ जाओ गुरु के पास जाओ तो टोटल ह्यूमिलिटी दिल में रख के जाना है और मैं कुछ नहीं जानता ऐसा दिल में रख के चले जाओ तो उनसे जो मिलेगा आपको वो आपका बर्तन में अच्छा रहेगा और आपको लाभ करेगा हम्म? ये दोनों चीज़ ऐसी है उसमें समर्पण भावना है समर्पण हम खुद को जानते नहीं हमें जानना मांगते हैं तो समर्पण हो जाता है वो समर्पण वो नाम जन्म से नाम हम जन्म पाते ही नाम मिलता है सभी धर्म में ये तो है हाँ तो नाम मिलता है तो खुद जन्म से ही नाम लेके तो कोई आता नहीं नहीं कोई तो आया होगा कोई आता नहीं तो नाम पीछे मिलता है और कहीं कहीं समाज में स्तरों में समझ में आती है कि नाम आती है तो बुआ आती है खुश हो जाती है और बोलते हैं हाँ हम नाम देंगे तो बुआ नाम देती है और बुआ नाम देती है तो उसका पैसा भी लेती है ऐसा मेरे ख्याल से हमें अब समझ में हो, होगा यहाँ है कि नहीं हाँ बुआ तो नाम हमें बोरो करना पड़ता है जन्म मनुष्य का होता है वो बोरोड जन्म है अपना खुद का हज नहीं जन्म पाते बोरोड महीना आगे थे और आगे हम हमेरा जो बोरोइंग किया था उसके लिए जन्म जन्म आने ही उसको खाली करना पड़ता है सारा मनुष्य जीवन जमन जन्म से आखिर तक केवल उसकी लायबिलिटी अर्थात उदारी वो चुकाने के लिए ही है मनुष्य इंसान क्योंकि कसी सभी भी धर्मों में लेकिन आज का मनुष्य खुद अपना फ्रूट खा लेते हैं खुद अपना सब कुछ और दूसरे का भी ले लेता है आज और हम साथ जब इस सृष्टि में देखे क्या है आज लिखो करो आप देखो जीव सृष्टि में देखे आप सभी जगह तो मनुष्य सिवाय इंसान के सिवाय देखो कुदरत से कैसा जीवन जाता है देखो तो आज का मनुष्य का अहम और मेरा मेरा करने में जो सारा जीवन जाता है हकीकत नहीं है है बड़े है लेकिन उसमें उसका विवेक होना जरूरी है विवेक विवेक जब एक सारा धन राशि कुछ जमा करता है तो कहाँ से नहीं हवा में से नहीं आता कहाँ से नहीं आता लेकिन यही पृथ्वी पर वो एक जगह कम होता है और उनके पास आता है ये है और मनुष्य आज ऐसा काल आया है कि जिन्हें जरूर है वो कुछ कुछ देख के इतने चमत्कारिक हो जाते हैं ओ बाबा ने क्या चमत्कार किया उसने क्या किया कोई मनुष्य एक चमत्कार कर नहीं सकता चमत्कार तो दिखता है सभी को वो एक विज्ञान है और विज्ञान की जानकारी जिसको कम है उसको चमत्कार लगता है तो चमत्कार तो कोई नहीं कर पाता और मनुष्य मात्र कोई भी मनुष्य हो उसको टॉयलेट तो जाना ही पड़ता है कौन बोलता है टॉयलेट नहीं जाएगा सभी को जाना पड़ता है वैसे सभी से भी लोग ऐसे टॉयलेट ऐसे तो वो लोग तो समझ गए कि जो हम मनुष्य हैं इंसान हैं तो हमें इंसानियत से मानवता से एक दूसरे के साथ मानव तौर मानव तरीके से जीना होगा हमें एक दूसरे का दुख सुख ले तो नहीं लेते लेकिन बांटते हैं तो किसी का सुख कम होता है महसूस कम होता है कुछ जाता नहीं और सुख भी बांटते हैं तो जो जिसे बांटा जाता है उसका और बढ़ता है और जिसको मिलता है खुश हो जाता है मनुष्य जीवन इसी प्रकार का है और गुरु गुरु की पहचान एक ही है कि उनकी नज़रों में वो कहाँ कहाँ देखे कहीं कोई आए तो वो खुद ही खुद को मिलता है खुद ही खुद को नमन करता है और उनकी नज़रों में वही सभी में उनकी महसूस उन्हें अनुभव अनुभव इतना विशाल है ज्ञानी का तो गुरु अलग है और ज्ञानी अलग है गुरु व्यवहार में संत पुरुष बोले गए सभी धर्मों में उनके उनकी टंग से बोले गए और जिन्होंने अपना अविनाशी आत्मा का स्वभाव और उनका सारी क्वालिटीज़ गुण जिसने गुरु की कृपा से पा लिया है समझ लिया है और शरीर जो है मन से वाचा से काया से उस शारीरिक शरीर के जो क्वालिटी है और सारी गुण है उसकी कोई भी समय सही ढंग से जान ली है ऐसी दोनों की जान के वो ज्ञानी पुरुष दोनों के बीच में अलग करके वो एक भेद रेखा डाल देते हैं भेद रेखा तो ऐसा भेद ज्ञान भेद ज्ञान मिले शरीर के साथ भगवान का तो काम हो जाता है और गुरु जब समझने में कोई भी मिले कोई भी मिले उनमें एक टोटल ह्यूमिलिटी सभी को महसूस होगी ही ये क्या है कौशिक एन कौशिक आपका आपको एन कौशिक हाँ अच्छा अजय अच्छा, अजय अच्छा। तो आखिर क्या लिखा है संभाली बड़ी है क्या लिखा है सन्यासी बड़ा है या गृहस्थी हाँ, हाँ सन्यासी बड़ा है या गृहस्थी समाज में कोई किससे बड़ा नहीं है और भगवान की भाषा में गृहस्थी बड़ा है तो गृहस्थी है उसका मतलब नहीं कि उसको भगवान की अनुभव नहीं हो सकती है हकीकत में भगवान तो कायम के अविनाशी है और शरीर वो विनाशी है अविनाशी विनाशी का वेदांकन होते हुए उसको जो जीवन चला जाता है पीछे उसके पीछे तो वो गृहस्थी को भी हो सकता है और सन्यासी समझता है कि हमें घर और घर के संबंध निकलेंगे तो हमें अच्छा हो गया चलो हमें रात में लेके करेंगे ये सही नहीं है हमेशा गृहस्थी महीना व्यवहार वाला गृहस्थी महीना व्यवहार के साथ वो सब समाज के सभी के शरीर का जीवन के सभी का व्यवहार है ने? और हम महीना निश्चय कायम का जो व्यवहार वाला है वो विनाशी है और हम जो है कायम के वो अविनाशी है और दोनों का साथ होके उसका वेदांक से थोड़ी समझ मिले तो उसको सही समझ मिल सकती है और किसी को ये ऐसा करता है वैसा करता है नहीं होगा सभी का उसी ढंग से सम्मान करेगा लेकिन उसमें कोई द्वंद्व स्वरूप जमित जीवन है उसमें उसको हैरान नहीं करेगा जिसकी समझ आए तो इसके लिए आप सबको मेरी नम्र विनंती है कि बाहर टेबल पर इस संस्था के माध्यम से सारा यहाँ का कौन सा नाम केंद्र का सनातन स्व संस्कार केंद्र सनातन स्व संस्कार केंद्र ऐसा जो यह स्थापना हुई है वो हॉल में सभी ये पुस्तकें होती है हिंदी की भी है अंग्रेजी भी तो ये भी आएगी तो वहाँ आज बाहर रखी गई है बड़ी अच्छी है छोटी छोटी पुस्तकें हैं जिसको जैसा लगे वो आप ले लेना वहाँ से ले लेना हमेशा एक सिद्धांत है कि ज्ञान और विद्या बिकी नहीं जाती क्या बताया ज्ञान और विद्या बिकी नहीं जाती लेकिन तो से क्या कैसा चलावे वो तो सब लोग ले करेंगे कैसे वो कुछ सोचने की ज़रूर नहीं है कुदरत है कुदरत को सभी को संभालती है कोई या उसको ज़्यादा उसको कम ऐसा है ही नहीं लेकिन हमारी कुदरत में महसूस हमारे जीवन में होती है कुदरत के बारे में तो हमारे जीवन के अनुभव अनुसार हम कुदरत को समझते हैं हम कितना करते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ना man supposes and God disposes और ऐसा सबको लगता है हम जो करते हैं वो होता नहीं है तो क्या कुदरत रूट रही है मेरे पर नहीं कुदरत रूट रही तो बहुत हैरान हो जाएंगे और आज का जीवन में सभी को अनुभव है सुनामियाँ आती है तूफान आता है सब कुछ आता है ये कुदरत अपनी मर्जी का नहीं है ये हमारे मनुष्यों से सारे स्पंदन ऐसे गए कुदरत में तो कुदरत के कायदे के विरुद्ध वाले हैं और कुदरत को सारा हिला दिया कहता और कुदरत का स्वभाव क्या है जो मनुष्य करे उसको बैलेंस कर देना बंद करना तो आज ये विज्ञान के युग में भी ये ज़्यादा बनता है और हम हैरान हो जाते क्या हो गया आज ऋतु चक्र है एक महीना कम से कम एक महीना से फेरफार हो गई है कुदरत कुदरत कुदरती है तो आपका कौशिक जी बरोबर है कौशिक जी की और जी सर पूछना है और मतलब वो गुरु की पहचान वाला जो प्रश्न था ना दादा गुरु की पहचान महीना उसमें असली मेरा पूछने का जो मकसद था वो ये था कि आज के लोग बड़े भ्रमित हैं गुरुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है संसार में हम्म। लोग भ्रमित हैं इसलिए सही पहचान से मतलब यही है अब पिछले कुछ दिनों से आपने भी सुना होगा दो इस तरह के वाक्य हो चुके हैं तो लोग डर रहे हैं गुरु बनाते हुए सही गुरु की पहचान से मेरा अर्थ ये था कि गुरुओं में भी अब बड़ा विचित्र मामला हो गया है कि किसको गुरु माना जाए गुरु ही जब गड़बड़ हो गए तो फिर उसका क्या इलाज है तो वो मेरा एक आपसे था उसके ऊपर प्रकाश डालने कि वास्तव में गुरु की पहचान क्या है गुरु के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए गुरु कैसे माना जाए कि सच्चा गुरु है यहाँ में बैठ करके मुझे सही ज्ञान मिलेगा सही मार्गदर्शन मिलेगा इस तरह से मैं इसलिए ये प्रश्न किया था आपसे गुरु इससे समझा जाए जिसको मिले वो तो गुरु समझने में उन्हें उसको सही ढंग से उसका आसपास का व्यवहार वगैरह समझ लेना चाहिए और उसके उसके अनुसार उसको तय करना चाहिए कि गुरु मुझे उससे फ़ायदा होगा ऐसा करना ही चाहिए गुरु का अर्थ ये नहीं है कि बड़ा और शिष्य छोटा नहीं नहीं नहीं कभी भी नहीं गुरु शिष्य से भी नीचा है बहुत ह्यूमिलिटी वाला है क्या और परम विनय वाला है क्यों कि उससे अंदर का भगवान और उनका प्रकाश है सभी प्रकाश वो खुदाईपन से इतना अच्छा हो गया है तो सबके साथ व्यवहार के सर सभी रहता है फिर भी उसकी खुदाई नज़रों से सभी को वो दुआ मिलती रहती है यहाँ ज़्यादा कम ऐसी होती ही नहीं गुरु ऐसी गुरु मिलना बहुत मुश्किल है ये कारण बहुत मुश्किल है समझे आप तो फिर भी अगर आपको कोई निशानी चाहिए उनको पहचानने की तो भले गुरु बनो लेकिन मैं सबसे छोटा हूँ ऐसी उसकी किल्ली आपके पास रखो उसको गुरु गुरु किल्ली बोलते हैं मैं छोटा हूँ नज़रों में से क्या और उसकी नज़र ढली हुई है नीचे मन से जीता है फिर भी सब मानते हैं तो उसको समझाते हैं व्याख्यान देते हैं सब कुछ करते हैं मतलब अंदर से हिजा जीता है ये गुरु है समझे ना उसको सदगुरु बोलते हैं क्या बताया सदगुरु अर्थात सद मीन्स एक मनुष्य को सारा जीवन में मेरा हित क्या है और कहाँ किस में मेरा हित नहीं है वो दोनों का विभाजन उसकी तरफ से बड़ा अच्छे ढंग से मिलता है और उन्हें अनुभव होता है कि ये सही हमें मार्गदर्शन देते हैं और करो उसके बाद लेकिन आज सभी ये धर्म और धर्म के बाबत में ऐसा कि कॉमर्स अंदर लग गया है कॉमर्स तो समझिए ना व्यापार हम बोलेंगे तो एक अच्छा सूत्र है दादा भगवान से मिला हुआ कि व्यापार में धर्म होना ही है क्या बताया व्यापार में धर्म होना ही है परंतु धर्म में व्यापार नहीं होना ये सबसे बड़ा सूत्र था बहुत गहरा सूत्र है अगर मनुष्य समझ गया तो कल्याण हो जाएगा और उससे किसी के ये अच्छा है बुरा है नहीं रहेगा खुद के लिए समझ लेगा साहब बरबर है कौशिक जी हाँ अच्छा हुँ? हम्म। मैं पढ़ लूँगा तो हाँ। ये दूसरी आँखों है हमारे निकालनी पड़ेगी डॉक्टर साहब ने दी है तो प्रयत्न करते कैसा दूर रखे पढ़ ले लेकिन ऐसा करो अच्छा है दो तो आंखें थी और चार बना दी क्या करें चार बना दी लेकिन मनुष्य को अपनी दृष्टि जो है वो दृष्टि आगे दिखती है पीछे नहीं दिख सकती ये है वहाँ मनुष्य की सही समझ अंदर पैदा हो गई है उसी को दिखाई देगा इसी को दिखाई देगा समझे तो पीछे दृष्टि है तो ही हमेरा गुना हमेरी भूल जो हुई है वो हमें दिखाई पड़ेगी जो पीछे दृष्टि नहीं है तो खुद की एक भी भूल नहीं दिखाई पड़ेगी और सभी में भूल तो दिखा उसको दिखता ही रहेगा हमेशा इसीलिए मनुष्य अपने आप अपना जीवन का प्रगति में रुकावट बन जाता है हाँ, हाँ दादा अच्छा कौन है सारे सौरभ सौरभ जी कहाँ है आ हाँ जाइए ठीक है ठीक है दा, दादा जब जीवन में सब कुछ मिलने के बाद अचानक छूट जाए या फिर किसी व्यक्ति के ना होते होने के कारण दूर जाए हाँ हो जीवन में कैसे अपने आप को संभाले ऐसी बात है ही क्या नाम नाम क्या सौरभ सौरभ जी हर एक को जीवन के बारे में अपनी शरीर से जीवन जिया जाता है उसके कारण हर एक को व्यक्ति को कुटुंब में और मोहल्ले में इलाके में और देश के लिए भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे बने हुए फिर भी खुद के हित के लिए जीना है वो खुद को समझना ही पड़ेगा कुछ कुछ को मिला कर हाँ, चला ही गया तो मिला वो चला गया क्यों चला गया इसकी खोज करनी बहुत जरूर है उसमें कुछ कारण है कुछ है यही मनुष्य का विज्ञान है जीवन का वो तो है उसको ढूंढ निकालने चाहिए तो जैसा शरीर जैसा तबीयत अच्छी नहीं है तो डॉक्टर कुछ कारण करके बता देते हैं हमें वैसा हमेरा है चला गया ये गया क्या कैसी हमारी जीवन जाएगी तो उसमें उसको हर एक मनुष्य को अपने ही बारे में अपने में मिलता है चला जाता है वगैरह में वो एक कर्म है कर्म का प्रकार है तो कर्म फल लेकिन उसको कर्म ही समझा जाएगा कि खुद ने खुद को खुद के जीवन के रास्ते में कांटे बिछाए हैं क्या कांटे आज नहीं बिछाए लेकिन आगे बिछा गए थे इसलिए शरीर में आपको ऑब्स्ट्रक्शन विघ्न समझिए ना ये सब आते रहते हैं रस्तों में जाते जाते जीवन में होता ही है तो खुद को समझ के लिए ये बात सिद्धांत के स्वरूप में अगर मनुष्य समझे कि अगर मैं पास्ट में था भूतकाल में था तभी भी अभी ये मनुष्य के रूप में हूँ मनुष्य के रूप में हूँ तो उसके ऐसे समझते कि अलग हो गए नहीं भूतकाल में थे वो अति सूक्ष्म स्वरूप से थे वहाँ भी मन वाणी और काया स्वरूपी सूक्ष्मता से मॉलिक्यूल से परमाणुओं से बना हुआ एक शरीर था ही लेकिन जब वो शरीर उनसे सर्जन हुआ करता था तब वो जो था और वो सर्जन हुआ तो उसको खाली होना ही है उसको चार्ज बोलते हैं क्या बताया चार्ज और चार्ज होता है फो टेलीफोन वगैरह आईफोन सब हम चार्जिंग में रखते हैं तो चार्ज पावर से ही होता है तो इसीलिए सारा विश्व में सभी मनुष्य को और जीव सृष्टि सभी को खास करके मनुष्य वो बहुत डेवलप है उसका मन का विकास हुआ है बुद्धि का विकास हुआ है उसका अहंकार बहुत विकास हुआ गया है और मन की उसको जानता देख के उसको उस पर चले जाने की ऐसी चित्त या कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं वो सभी उसकी फुल्ली डेवलप अच्छी ढंग से डेवलप है लेकिन ऐसी डेवलपमेंट होने के बावजूद शरीर में हम कौन है वो नहीं जानते हमेरे खुद के घर में बिना जाने हमारे खुद घर में ढूंढते हैं हमेरे कई अरे मेरा घर कहाँ मेरा घर कहाँ ऐसा ढूंढते हैं बगल में बच्चा है और बच्चे को ढूंढते हैं बच्चा बहुत प्यारा है माँ को अरे मेरा बच्चा कहाँ मेरा बच्चा कहाँ तो अरे भी आपके बगल में है हाँ तो चश्मा हमने लगाए और ऊपर ले ए, मेरे चश्मे कहाँ गए सब चश्मे हैं आपके ऊपर है ऊपर ही है तो ऐसी ये बात है अपने इतने निकट में भगवान है इतने निकट में इसीलिए उसकी महसूस होनी अति मुश्किल है और ज्ञानु पुरुष को महसूस और अनुभव पूरा हो गया है तो उनकी कृपा से आपको हो सकता है लेकिन जिसका पुण्य हो भाग्य हो तो हो जाएगा उसका इस मतलब ये नहीं कि एक, एक दूसरे से भेदभाव करते हैं पुण्य भाव और पुण्य भाव नहीं हो तो नहीं जिसका पुण्य ऐसा नहीं होता ना तो उसको संसार में कैसा रहना वहाँ वहाँ रहना उसका वो चलेगा ही हो तो कैसे ही तरीके से आएगा तो भी यहाँ टिकेगा नहीं वो ऐसा होता है जिस टिकता है उसका तो बड़ा अच्छा अच्छे कर्म है उसके कारण उसको मिल जाता है तो सौरभ जी सौरभ जी चलेगा अच्छा थोड़ा एक पद नाना छोटा बहुत बोलेगा भाई साहब कौन कौन सा इंसान हाँ बोलो बोलो खाटो છે क्या करे कुछ खट शक्कर हो तो अच्छा रहता है नहीं पिया जाए शक्कर मीठा तो मीठा बस बस आई परमात्मा तो एक कौशिक का रखिए जय सच्चिदानंद सौरभ जी आइए एक ही रहा अभी मेरे पास एक चिट्ठी है वो दूसरी आई अच्छा ठीक है एक चिट्ठी है उसको ले अपन उनका प्रश्न है क्या परमात्मा का कलयुग में अवतार होगा होगा तो कब ये कौन पूछते हैं देखो ना जो है वो चलो आपका आपका है ठीक है ये प्रश्न आज के काल में सभी धर्मों में है सभी धर्मों में और सभी लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई बोलता है प्रॉफिट आएगा कोई बोलता है संदेशा लेने वाला आएगा सब सब सभी धर्म में होते हैं और अवतार किसको बोलते हैं कि जन्म से वो आगे के जन्मों से तैयार होते होते आए और इस जन्म में इतने सादेपन से आए हैं और शरीर में सभी जगह सभी तरफ और सभी तरफ निरीक्षण करते रहते हैं सारा जीव सृष्टि को और उसी में मिलता है तो सारी जीव सृष्टि है और हम में क्या फ़र्क है हमने क्या फ़र्क है और ये मनुष्य एक प्राणी ऐसी है कि उसमें फ़र्क करके यहाँ गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है तो ये अवतार की बात पूछी आपने तो अवतार ज्ञान का होता है क्या बताया आत्मा का परमात्मा स्वरूप प्रकाश वाला ज्ञान का होता है और ज्ञान ये काल में सर्वज्ञों का ज्ञान है सारा विश्व ऐसा हाथ में छोटी बीज है ऐसा को दिखाई देता है विश्व वो ये काल में संभव नहीं है क्यों ये काल का कारण है काल के कर्मों का कारण है क्यों कि अपना व्यवहार ऐसा सभी का हो गया है वैसा ज्ञानी पुरुष का व्यवहार भी ऐसा है इसीलिए ज्ञानी पुरुष वही अवतारी पुरुष है लेकिन उनके जीवन में जो दादा भगवान थे ऐसी साल का वहाँ उसको उसकी सेलिब्रेशन हो गई और दो महीने में दे छूट गया उनको 58 अट्ठावन साल में के अंदर करीब मई महीना था आखिर का सूरत स्टेशन पर भुसावल से गाड़ी आती बड़ौदा जाने के लिए बदलनी पड़ती थी वहाँ समय मिला था बैठे थे बैठे थे उसी समय वो समय आया कि आत्मा पर सारे पर्दे बहुत कही है तो उसके पर्दे बहुत अच्छे हो गए बहुत अच्छे हो गए बैठे और उनकी राइट पॉजिटिव और अहिंसक विचार शक्ति का वो आ गया शिखर आ गया और वो सब सरक गए एक घंटा तक एक बड़ा ये हिमालय स्थिर है ऐसी स्थिरता से रहे सादा पुरुष धोती कोट काली टो, काली टोपी और कोट शर्ट बूट है सब कुछ है और कोई कल्पना नहीं कर पाता कि भगवान जो वो अवतार होते हैं वो ज्ञान का होते हैं इसीलिए दादा भगवान का भी हमें सामाजिक दृष्टि से तो ऐसा ही देखते हैं भगवान अवतार लेते हैं अवतार का मतलब जन्म लेना और दरअसल उसका अर्थ यह है कि वो व्यक्त होना जन्म के पश्चात जीवन में कहीं एक क्षण आती है वहाँ वक्त हो जाता है तभी यह अवतार समझ समझा जाता है आप समझे समझे ना तो ये अवकार अवतार में समाज में जो समझ है वो अलग तरीके से है उसको हम तो मिथोलॉजी भी बोलते हैं और सभी धर्मों में ऐसा होता ही है और ऐसा न हो तो सभी लोग अपने अपनी मर्जी से जिए तो समाज में व्यवस्था भी हो, व्यवस्था होती है सभी सभी समाज में होती है आप समझे हाँ लेकिन अगर कोई संत कोई भी हो तो खुद को ऐसा ये बड़ी गलत है बहुत गलत है तो अवतार होता है ज़रूर और एक समय में उन्नीस सौ में हो गया था और ऐसीवा साल जो उसकी सेलिब्रेट हुई दो महीने के पश्चात देह गया अभी और उनके जगह तब से आज पच्चीस साल से ये शरीर उनकी काम जगह यानी कम कामकाज ये दिव्य कामकाज संभाल रहा है तो जिसको जिसको ये शरीर मिलता है उससे उनको लाभ ले लेते हैं लोग हम खुद नहीं देखे हम खुद नहीं दे पाते किसी को क्यों कि अंदर की भगवान और प्रकाश खुली हुई है उनकी दुआ कृपा वो कृपा से उनकी सारी नेगेटिविटी ये है जीवन में कई कई कारणों से होती है आज का काल के आज काल के संदर्भ में खास करके वो सब निकाल देते हैं और सारा खुद का जीवन मिला है तो वर्तमानता से कैसा जिया जाए उसको सही समझ दे देते हैं सही समझ और वर्तमान में जीवन ऐसे कठिन समय में कैसा जाए हर एक के लिए घर में कुटुंब में और सभी तरह से आखिर सभी एक्सपांड होते रहते देश ले देश के लिए भी सभी लोग है लेकिन आज हमेशा वो राज्य सत्ता होती है थी लेकिन आज यहाँ धर्म के साथ की राज सत्ता नहीं रही है इसीलिए लेकिन सत्ता तो होने ही वाली है सत्ता के बिना कोई चलता ही नहीं नहीं तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी लेकिन उसमें जितना हम सभी को समझ में आवे और बोले हाँ अभी ये है तो समझ में आया तो उसका सभी तरह से देख के उसको लागत बराबर है ऐसा होता है तो आ, हो गया है समय चलता है लेकिन इतना बड़ा देश है आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा जता है समझे उसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो होने ही वाले हैं लेकिन ज़रूर प्रगति होती रहती है ये हम आपको बता देते हैं दिखाई अब दिखाई पड़ती है सबको ये, लीजिए साहब एक, एक पद लगे साहब हाँ जी थोड़ा ये ले लो हाँ पानी पियो आप अच्छा हाँ, भाई एक पद बोलो हाय चलो किसी हाँ के काम दूर रखो। जो दूर रखो आए हाँ चलो हाँ सबको सुनाई पड़ता है ना उसे इंसान कहते हैं उसे इंसान कहते उसे हम याद कर को सुख मिलता है जो करनी है वही भरनी जो करनी है वही कर्म कहते सुख है मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं उसे इंसान कहते हैं जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद आपने पूछा वो आगे की चिट्ठी थी उसमें हुँ? हम्म? तो को सभी में आत्मा है आत्मा है तो किसी को सुख दुख आता है तो दुख किसके लिए आता है कैसा आता है तो सबको लगता है आत्मा उसके एक शंका संशय ऐसा हो जाता है और भगवान के बारे में भी शंका और संशय हो जाती है आत्मा स्वयं भगवान है अर्थात आत्मा की जो गुणी क्वालिटीज़ है सभी वो शरीर प्रकृति है वो प्रकृति की क्वालिटी से बिल्कुल अलग है शरीर की क्वालिटी सभी विनाशी है जन्म से सारा जवन दरमियान आती जाती आती जाती रहती है आत्मा आत्मा ही होता है आत्मा एक संज्ञा है चिन्ह है समझने लिए कि शरीर के अंदर हमारे अलावा क्या है सब ये ढूंढते हैं सबसे बड़ा प्रश्न है वो एक संज्ञा है हकीकत में उसके लिए चेतन शब्द बताया है चेतन समझते हैं बोलो ने चेतन बोलो ने नहीं हा? चेतन और चेतन बोलते हैं और जड़ जड़ इस ढंग से सभी को उलझने पैदा हो जाती है और अगर वो जीवन में सुख आवे दुख आवे आए जाए इसको भी हो उसका जीवन भाई तय कर ले जो मान्यता भगवान की है तय कर ले कि सुख मिला तो भी वो भगवत कृपा दुख मिला तो भी भगवत कृपा जैसे हमारी पूजा वगैरह होती है और प्रसाद ले लेते हैं प्रसाद प्रेम से स्वीकारते हैं ऐसा जो घटे जीवन में वो सभी प्रसाद के समय स्वीकार कर लो भगवत कृपा तो सभी वो प्रोटेक्टेड सारा जीवन में हो जाएगा और उसको ये ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा किसने पूछा प्रश्न आपकी समझ में आया है हाँ? ये अभी पद बोले कि नहीं जो हमें से किया है वही हमारे पास आता है कोई कोई भेजने वाला नहीं है तो कैसा जीना जैसा जीवन जाता है वैसा उसके प्रति प्रति स्वरूप से अपने पास आता है लेकिन ये जन्म में जो जीवन जाता है उसमें अगले आएगा और यहाँ अभी आया है वो आगे का आया है इसीलिए साहब ने समझाया था आपको कि कारण और कार्य ये चक्र जन्म और मरण का चलता ही रहता है जो मर मर्गी है उसमें इंडा मिलता है सबको और इंडा मिलता इंडा है तो उसमें मर्गी मर्गी भी जन्म पाती है मर्गी जन्म पाती है पीछे उससे भी इंडा होता है और इंडा से मर्गी ये मोह और तृष्णा ये द्वंद्व का ऐसा स्वभाव है जीवन में मोह और तृष्णा समझे आप मोह क्या कि जहाँ आंखों देखे वहाँ हमें आकर्षण हो जाता है और आकर्षण हो जाता है कभी न पसंद पड़े तो विकर्षण भी हो जाता है समझे न इंग्लिश में बोले तो एट्रैक्शंस एंड एवर्जन्स ये बना ही रहता है जीवन में उसमें समझ से जैसे जैसे निकलते जाए तो अपना जीवन में सार्थकता आती ही है हुँ? हम्म? आगे का प्रश्न है हाँ बोलो साहब जय सच्चिदान कल आप लेंगे कौन सा आ, हाँ, जरूर हाँ आप दीजिए किसी मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ अच्छा हमारे शास्त्र भी कहते हैं दूर रखना हाँ हमारे शास्त्र कहते हैं और सभी मानते कि इस एक है सभी मानते ईश्वर एक है हाँ और आत्मा अजर अमर है आत्मा नष्ट नहीं होती सब में मौजूद है और हमारे ऋषि मुनियों का इतना ज्ञान रहा है इस बारे में कि भारत ने ये साबित किया है कि शरीर में जो आत्मा है वो ही महत्वपूर्ण है जिसने ये पहचान लिया कि के अंदर आत्मा नाम की चीज़ है शरीर का कोई अर्थ नहीं है उसका स्तर क्या है और दूसरा इतना कुछ ऋषि ज्ञान होने के बावजूद भी हमारे देश में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर आत्मा का शासन स्थापित नहीं हो पाया क्यों आत्मा के लेवल पे सभी बराबर हैं लेकिन न तो राजनीतिक व्यवस्थाएं समानताएं दे पाई हैं न प्रशासन समानताएं दे पाया है एक भूख चपरासी को भी उतनी लगती है और कलेक्टर को भी उतनी लगती है लेकिन चपरासी को डीए पचास रुपये मिलेंगे और कलेक्टर साहब को पाँच सौ रुपये मिलेंगे तो क्या हम आत्मा के लेवल पे जी रहे हैं जिनको व्यवस्थाएं सौंप रहे हैं वो आत्मा का मार्गदर्शन दे रहे हैं आपका प्रश्न एक तो आत्मा के बारे में है और आत्मा के बारे में जय सोच है अलग अलग प्रकार से कि ईश्वर एक है या अनेक हम्म? ईश्वर तो सर्वव्यापक चारों तरफ है आ, हाँ, समझ मैं समझ गया इसमें भाई बहुत सोच हो रही है सभी प्रकार के सभी समाज के सभी स्तरों में उसमें एक और अनेक की बाबत में और वो आत्मा की ब्रह्म की बाबत में वो उसमें एक और अनेक का जो अर्थ है वो गल अलग है जो लोगों में समझ है ऐसा नहीं है संतों में भी समझ है ऐसा नहीं है इसीलिए संतों के प्रकार पर जगह है जुदे जुदे समझ में तो लोग मानते हैं ये जैन लोग एकेश्वर ईश्वरवाद नहीं मानते वो तो कहीं मानते हैं नहीं ऐसा वो समझ में फ़र्क है थोड़ा समझ में दोनों को जगह तो एक ही जाना है लेकिन अपना रास्ता अलग है वो तो सभी धर्मों में होता है समझे न किसको जन्म में से हमेरे जिन जंजीर से छुटकारा पाना किसकी इच्छा नहीं होगी सभी को सब समझते हैं और साधन तो बंद कर लेते हैं लेकिन कितने साधन करने बाद अच्छे अच्छे लोग योगी लोग वगैरह उसको महसूस होता है लेकिन किसी को बता बताया नहीं जा सकता उससे खुद समझ देता बोलता नहीं तो अगर वो निकले बात तो एक दूसरे मनुष्य एक दूसरे को समझे समझे तो प्रगति हो नहीं तो क्या होगी तो ये सब साधन करते करते एक ज्ञानी पुरुष ने बताया है कि सौ साधन बहुत साधन किए छूटने के लिए बंधन हो गए जो छूटने के लिए साधन करते हैं क्रियाएं करते हैं वो एक साधन हमें बनता है सब जानते हैं सब जानते हैं बोल नहीं पाता है कोई बोल नहीं पाएगा हाँ सौ साधन बंधन हुए और कहाँ तक कि कोई उपाय बाकी न रहा जितनी ताकत है लगा दे कोई उपाय बाकी नहीं रहता है उसको हाँ क्यों तो कि सत साधन समझे नहीं सत साधन जो समझे नहीं तो वहाँ बंधन कैसा जाए आप समझे सत साधन बहुत जरूर है बहुत जरूर है और समाज में चलता है सब चल, वो सद साधन चलता है अर्थात मनुष्य मनुष्य का विनय विवेक करे विवेक विवेक करे मनुष्य मनुष्य के नाते जिए एक दूसरे के साथ वो विवेक होता ही है वो तो आज भी इस भाषा में तो सब कुछ है लेकिन नज़रिया में कुछ नहीं आता और विवेक से जिसकी सोच थोड़ी आगे गई है उसके लिए सदविवेक होता है क्या बताया सदविवेक सद महीना हमारे जीवन में हमसे सो भी जिया जाता है और बनता रहता है उसमें हित वाला क्या है हमारे पक्ष में और अहित वाला क्या है हमारे पक्ष में उसका उसको विभाजन होकर सही समझ आती है उस सोच विचार वाले आगे जाए विवेक सदविवेक अब समझे और उसके पश्चात भगवान और भगवान की पहचान करने वाले ऐसे होते हैं ज्ञानी पुरुष वो अपने मिलते ही हमें विनय गुण खुलता है विनय वो विनय समाज में उसको विवेक के समझ में समझ लगते हैं लेकिन विनय अलग है विनय धर्म का टैप रूट है द्वारी मूर है कितना बड़ा वृक्ष हो एक ही मेन रूट पर वो खड़ी है कितना बड़ा खड़ा है वृक्ष समझ उसकी सारी शाखाएं कितनी कितनी कहाँ कहाँ तक गई है समझे तो विनय वो धर्म का मूल है और वो एक दफ़े आपके अपना साया तो आहिस्ते आहिस्ते समझते समझते समझते हमें परम विनय होगा परम विनय होना इतना आसान नहीं है विनय है तो मानव के तौर से मानव से मानव के समाज में इंसानों के साथ सभी वो इंसानियत से मानवता से जीवन बिताए वो तो पसंद पसंद वाला नापसंद वाला मित्र मित्र है शत्रु है कोई भी हो लेकिन जिसको अपना जीवन से सही निकल जाना है वो तो अंदर से जीना ही पड़ेगा जीना ही प्रश्न ये था आत्मा तो सभी में है और किसी ने अपने शरीर में अनुभव कर लिया आत्मा तो आत्मा, सभी में है आत्मा सभी में है सभी में है लेकिन और, उसका स्वभाव एक है नहीं किसी ने यह अनुभव कर लिया कि आत्मा शरीर से अलग है तो उससे आगे और भी कुछ जानने की जरूरत है क्या ऐसा है न हमें हमको हम खुद को पहचान लिया पीछे इसीलिए तो जीते हैं हम खुद को पहचानो तो आपकी खुदाई जीवन चालू चालू जाएगा बिल्कुल चालू हो जाएगी हमें कई कई प्रकार के किस्म के मनुष्य मिले हैं कहीं कहीं अनुभव होता है लेकिन सभी को एक सर का अनुभव कैसा होता है सभी का कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी शरीर है ना उसके मतलब के पर है मतलब ऐसा है कोई चीज़ विश्व में गलत नहीं है क्या जो है वो आगे की एक स्टेम का है गलत किसी को कोई बोली सब बोल सकता ही नहीं सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सच्चे हैं लेकिन सरखे नहीं होते सच्चे जरूर होता है इसीलिए तो विश्व का सभी धर्म सच्चा है ऐसा तो सब लोग जानते हैं सभी लोग जानते हैं और पर वो धर्म में जितनी सोच जो दबा समाज बैठा गया है बीच में कि भाई ये संत है ये संसारी है उसमें ये सब थोड़ी थोड़ी उलझनें पैदा हो जाती है होनी ही है वो तो वो तो चलती ही रहती है बस चलेगा सब आज कल कल साहब लोग आपको बताते हैं मेरे आपता पुत्र उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य लेके सभी के लिए ही जीवन निकाल दिया है सभी पढ़े लिखे हैं तो बोलते हैं कल हमारा आखिर का दिन है और सुबह कौन सा टाइम है दस से बारह दस से बारह वो कौन सा जगह सनातन स्व संस्कार केंद्र स्व महीना खुद के लिए संस्कारित होना वो केंद्र वो बना है तो सभी के लिए है उसमें उनके उनके ऐसा कुछ नहीं है कोई भी आ सकता है उसमें और उसको जो ठीक लेके वहाँ से लाभ लो पुस्तकें हैं लाइब्रेरी है सब कुछ है तो वहाँ दस से बारह हम मिलेंगे तब ये दो चिट्ठी है हम ले लेंगे चलेगा और शाम को हमें शाम की गाड़ी को जाना जाना है हा? हम नहीं जाएंगे ये शरीर जाएगा और गाड़ी है तो गाड़ी ले जाएगी लेकिन हम गाड़ी में आराम से बैठेंगे तो गाड़ी हमें जहाँ जाना है वो छोड़ देगी लेकिन हम क्या मानते हैं कि हम जाते हैं तो इसीलिए थकान लगती है हमें ये बस साइकोलॉजिकल इफेक्ट है सब सारा लाइफ ये ज़माने में उससे समझ सोच से जितना जितना बाहर आके करें संघर्ष तो होना ही है सारा जीवन संग्राम है संघर्ष होना ही है कहाँ जाएंगे आपके हाथ में है कुछ ये बात समझ नहीं है हम्म? सभी धर्मों में संदेशा तो एक ही है उसमें चलो मानव जीवन के लिए तो हाँ अभी हम जरा एक प्रार्थना बोल ले हाँ जी दादा मैं मैं बुलाता हूँ हाँ? शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना बोलता समझ समझ में नहीं आता क्या बोलता शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना बोला हूँ यही बोलते हैं ना तो एक मंत्र है सारा भारत के लिए सबको जुड़ने वाला है हम धर्म में बांटे गए हैं लेकिन सबको जुड़ने वाला है उसमें खुदाई सत्ता भी है अगर उसको समझ में उसे समझ ले तो सभी है उसमें बोलो ये मंत्र तीन मंत्र बोलते हैं ये अनाज से चाले आए आज है लेकिन बांटे गए हैं मंदिरों के साथ साथ इसीलिए संसार में सबको दुख की महसूस होती है अगर साथ में हो तो सभी मंत्रों के पीछे उसका रक्षक देव देवी होता ही है और अंजारे में हमें उसको ऐसी पहुँचती ठेस उसके कारण जीवन में दुख आते हैं तो ये तीन मंत्र बोलते हैं नमो वरिहंताणम नमो वरिहंताणम सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो नमो उवजायाणं नमो लोय सव सावणं नमो लोय सव सावणं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सव पारपणासणो सव पावपणासणो मंगलानं च सवेसीं मंगलानं च सवेसीं पडमं हवै मंगलं पडमं हवै भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद मेरे खुद के अंतर के खुदा परमात्मा जो बोलो उनके लिए हम खुद एक प्रार्थना बुलाते हैं अब बोलना ध्यान से हे अंतर्यामी परमात्मा हे अंतर्यामी परमात्मा आप हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान है आप हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान है वैसे ही वैसे ही हरे में अभी भी हमेरे में भी विराजमान है हमेरे भी विराजमान है आपका स्वरूप आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है वो ही मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है शुद्ध आत्मा भगवान हे शुद्ध आत्मा भगवान मैं हम आपको मैं आपको अभेद भाव से अभेद भाव से अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता है अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता हूँ अज्ञानता के वश अज्ञानता के वश मुझसे जो जो भूले हुई है मुझसे जो जो भूले हुई है उन सभी भूलों को उन सभी भूलों को आपके समक्ष रखते हैं आपके समक्ष रखते हैं उनके लिए हृदय से खूब पछतावा करते हैं उनके लिए हृदय से खूब पछतावा करते हैं हे प्रभु हे प्रभु हमें क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो हमें क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो और फिर से हम वैसे भूलो ना करें और फिर से हम ऐसी भूल ना करें ऐसी आप हमें शक्ति दो ऐसी आप हमें शक्ति दो हे शुद्धात्मा भगवान हे शुद्धात्मा भगवान ऐसी कृपा करोगे आप ऐसी कृपा करो कि जिससे जिससे हमें हमें मानव मानव जीवन के व्यवहार का मानव जीवन के व्यवहार का सभी भेदभाव दूर हो जाए सभी भेदभाव दूर हो जाए और हमें और हमें अभेद दृष्टि प्रदान हो अभेद दृष्टि प्रदान करो हो आप आप अभेद दृष्टि से अभेद दृष्टि से हम हम अभेद दृष्टि से अभेद दृष्टि से आप में आप में तन्मय आकार रहे तन्मय आकार रहे अभेद दृष्टि से साथ में हो जाए अभेद दृष्टि में ना व्यवहार में सारा भेद वाला है अंदर से अपने सोच समझ से ऐसे विकास होती जाती है यही है सारा विज्ञान है विज्ञान कभी भी फिक्शन नहीं है सारा विश्व में चला है आज फिक्स फैक्ट है फैक्ट टोटल फैक्ट है इतनी बात थोड़ी समझ काम हो जाएगा समाज और सामाजिक जीवन अलग होता है और ये ही जीवन खुदाई अल्लाह परमात्मा आत्मा के संबंध में सभी एक ही होता है उसमें कोई नहीं हुँ? हम्म? सभी प्रकार के ऐसे पुरुष होते हो ही करते हैं उससे सबको फायदा हो जाता है हुँ? हम्म? और सारा विश्व में इतनी कठिन परिस्थितियों में सोचते हैं कोई फरिश्ता आएगा कोई प्रॉफिट आएगा वगैरह वगैरह ऐसी तो समझ में तो लोगों को ऐसी होनी है क्या होती है चलो जय सच्चिदानंद हाँ जी एक मिनट आज रात को अभी प्रसाद हमारे सनातन स्व संस्कार केंद्र में प्रतापबंद में है और उस प्रसाद प्रसाद के बाद नौ से साढ़े दस बजे तक हमारा गरबा का प्रोग्राम है वही हॉल में सुबह 10 से 12 बजे तक हमारा सत्संग वहीं पर प्रतापबंद रामायणी हनुमान मंदिर सनातन स्व संस्कार केंद्र में प्रोग्राम रखा है अभी प्रसाद के बाद भी 9 से साढ़े दस बजे तक वहाँ है गरबा का प्रोग्राम है और सुबह 10 से 12 बजे तक सभी को आमंत्रित करते हम जय सच्चिदानंद और सभी नए आए हुए मुमुक्षु भाई बहनों को सत्य साधन की किताब चाहिए सत्य साधन की किताब चाहिए तो जरूर काउंटर पे से मिल जाएगी त्रिमंत्र नमस्कार विधि नवकल में शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना ये सारी चीज़ें